एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे ओम पांच क्लेश हैं इनमें अविद्या की बात हो गई अब अस्मिता सूत्र छे सूत्र बोलिए दृक दर्शन दृक दर्शन शक्तियोर शक्तियोर एकात्मता एकात्मता इव इव अस्मिता अस्मिता सूत्र का अर्थ है एक है दृक शक्ति देखने वाली शक्ति जीवात्मा दूसरी है दर्शन शक्ति दिखाने वाली शक्ति बुद्धि जो जीवात्मा को दिखाती है इन सब संसार की वस्तुओं का ज्ञान कराती है अनुभव कराती है भोग भी यही कराती है मन से तो हम विचार करते हैं ये काम करूं या नहीं करूं अच्छा है बुरा है इसमें लाभ होगा या हानि होगी ये तो विचार है ये है सहयोग मन का इसकी सहायता से जीवात्मा ये विचार करता है करता जीवात्मा है मन साधन है ये इस विचार करने में फिर अब इसका जो निर्णय लेना होता है कि हाँ ये काम ठीक है ये करूंगा ये जो डिसीजन लिया ये लिया बुद्धि की सहायता से तो बुद्धि यहां पर साधन है डिसीजन दिलाने में बुद्धि स्वयं निर्णय नहीं करती वो तो जड़ है मन भी जड़ है न मन स्वयं सोचता है न बुद्धि स्वयं निर्णय करती है वो सहयोग करती है मोटा उदाहरण है जैसे चश्मा क्या चश्मा देखता है वो देखता नहीं वो देखने में सहयोग करता है टेलीस्कोप वो देखने में सहयोग करता है टेलीस्कोप नहीं देखता कुछ भी वो दिखाता है एक उपकरण है इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही मन बुद्धि ये सब भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये उपकरण ये दिखाते हैं तो मन की सहायता से जीवात्मा विचार करता है बुद्धि की सहायता से निर्णय लेता है और निर्णय ले लिया कि हाँ इस वस्तु को खाना है इसका सुख लेना है फिर निर्णय लेकर वो खाना शुरू करता है फिर उसका सुख लेता है अब जो सुख को भोग रहा है ये जो उसकी भोग अनुभूति है फीलिंग ये बुद्धि की सहायता से भोगने में भी तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए कौन से इंस्ट्रूमेंट से वो भोगता है फीलिंग करता है तो मन में जान आ गया मन में तो सूचना आई कि मीठा है खट्टा है बढ़िया है स्वादिष्ट है ऐसा है ठीक है मन में सूचना आई अब देखिए एक तीन कक्षा का विद्यार्थी एक एमएससी पास है दो व्यक्तियों को हलवा खिलाओ क्या दोनों को एक जैसा टेस्ट आएगा या फर्क होगा हलवा सेम मिठास सेम सारी बातें सेम एक अनपढ़ आदमी वो अखबार पढ़ता है कम जानता दो तीन कक्षा पढ़ा और एक पीएचडी है वो अखबार पढ़ता है दोनों के पढ़ने में अंतर होगा ना बुद्धि का अंतर इसलिए उस चीज का लाभ भी वो कम अधिक उठा पाएंगे तो जितनी योग्यता अधिक होगी उतना ही वो उस चीज का लाभ ले पाएगा कम पढ़ा हुआ आदमी किसी भी विद्या का कम लाभ लेगा अधिक पढ़ा हुआ आदमी वो अधिक समझता है उसका अधिक लाभ लेगा तो उसका सुख भी अधिक भोगेगा तो ये सुख भोग करवाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है बुद्धि संख्य दर्शन में एक सूत्र है भोगो बुद्धि सीधा सीधा शब्द यही है सूत्र का शब्द यही है भोगो बुद्धि भोग करवाना बुद्धि का काम लगभग छठे अध्याय में मिलेगा ये सूत्र तो अब यहां पर भोग की चर्चा है कल मैंने संक्षेप से बताया था कि जब जीवात्मा कोई भोगता है कोई चीज खाता पीता है तो वो ये समझता है कि मेरे अंदर जा रही और वो उसको अपने आप को उस वस्तु का भोगता मान लेता है कि मैंने खाई बस ये ये अस्मिता क्लेश है तो यहाँ कह रहे हैं भोगवाने वाली तो है बुद्धि और भोगने वाला है आत्मा ये दो शक्तियां अलग अलग हैं आत्मा का नाम है दृक शक्ति और बुद्धि का नाम है दर्शन शक्ति ये भुगवाती है हैं ये दोनों अलग अलग फिर इन दोनों को अलग अलग होते हुए भी एकात्मता इव दोनों को एक ही वस्तु समझ लेना इसका नाम अस्मिता क्लेश है ये अस्मिता क्लेश की परिभाषा ठीक है ये सूत्रार्थ हो गया इससे मन का ग्रहण नहीं करें ना मन अलग चीज मन से तो चिंतन होता है विचार होता है डिसीजन नहीं मन से तो विचार होता है खाऊं कि नहीं खाऊं अच्छा है बुरा है हानि होगी या लाभ होगा क्या करूं ये सोचने का काम थिंकिंग मनन ये मन के द्वारा होता है और निर्णय जो फाइनल लिया जाता है वो बुद्धि की सहायता से लिया जाता है ठीक है मुझे समझ में आ गया ये काम करूंगा ये जो डिसीजन लिया आत्मा ने ये बुद्धि की सहायता से लिया यहाँ तक तो मैं समझते थे आप हाँ अब अब इतना निर्णय होने के बाद जब भोगना है ना उसका मजा लेना है अब अब इस पॉइंट पर आ जाइए उसका मजा लेना एक आदमी ने डिसाइड कर लिया मुझे इसका मजा लेना हलवे का खीर का पूरी का मिठाई का मुझे इसका सुख लेना है तो जब मैं सुख लूंगा तो भी तो कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए फिर से मन के पास जाके संकल्प विकल्प तो होगा उसका मन में तो वो आएगा रसना इंद्रिय से हाँ। रसना इंद्रिय हलवे में से टेस्ट को खींचेगी मन को फॉरवर्ड करेगी फिर मन में वो टेस्ट आएगा आत्मा उस मन वाले टेस्ट को देखेगा जानेगा फिर बुद्धि का हेल्प लेगा बुद्धि का सहयोग लेगा और कहेगा हाँ बढ़िया है वाह मजा आ गया हो इसको खींचो इसको भोगो अब ये जो भोगने का काम है ये बुद्धि की सहायता से करेगा बुद्धि दो प्रकार के काम हम्म। निर्णय लेना निर्णय लेना और भोगवाना सुख दुख को भोगवाना अच्छा जो बुद्धिमान होगा जिसका नॉलेज अच्छा है बुद्धि काम बढ़िया करती है वो क्या करेगा जब दुख आएगा तो उसको ब्रेक लगा देगा हाँ नहीं ये नहीं भोगना दुख को नहीं भोगना सुख को भोगना उसके पास इतनी योग्यता है ज्ञान विज्ञान है उसकी बुद्धि ऐसा काम करती है तो वो अपनी बुद्धि से मन से आदि आदि साधनों से वो सुख को बढ़ा लेगा दुख को कम कर लेगा अगर बुद्धि योग्यता कम होगी ज्ञान विज्ञान कम होगा तो दुख को बढ़ा लेगा और सुख को घटा लेगा सात लाख का फायदा हुआ व्यापार में फिर भी कहेगा साहब तीन लाख का घाटा हुआ दस लाख का टारगेट था तीन लाख कम मिला वो वो देखो मूर्खता से अब वो दुखी रहेगा सात लाख का फायदा होते हुए भी वो दुखी रहेगा जो बुद्धिमान होगा वो तीन लाख को नहीं देखेगा वो कहेगा दस लाख का टारगेट था सात लाख मिला सात लाख मिला उसको देखो मजे से खाओ पियो मजा करो प्रॉफिट कमाया सात लाख उसको देखेगा तो देखिए दोनों में फर्क आ गया ना ऐसे आता है अंतर है दोनों के पास बुद्धि है दोनों के पास मन है पर सोचने का ढंग अलग है तो उस ढंग से वो निर्णय लेता है और फिर जो उससे जो भोगता है सुख दुख को उसमें सहायता करती है बुद्धि तो यहाँ उसकी चर्चा है कि जब भोग कराती है बुद्धि और जीवात्मा ये मान लेता है कि ये भोग मैं कर रहा हूं मुझ में जा रहा है आत्मा में बस वो अस्मिता क्लेश और जब वो ये मान लेता है ये भोग आ तो रहा है और ये बुद्धि पे आकर के रुक गया मुझ में नहीं एंट्री कर रहा आत्मा में एंट्री नहीं हो रही है ये बस बुद्धि तक आके रुक गया मैं तो बस दूर से देख रहा हूं जैसे आप शीशे में दूर से शक्ल देखते हैं तीन फीट चार फीट दूर से आप शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं बस फीलिंग ही तो होती है जानकारी होती है इतना ही होता है और वो शीशे वाली चीज आपके अंदर थोड़ी घुस जाती है बस एक जानकारी होती है तो जो भी जीवात्मा का भोग है ये प्राकृतिक वस्तुओं का वो पैसे कमा रहा है सोना चांदी मकान मोटर गाड़ी संपत्तियां जमा कर रहा है मैं इन चीजों को भोग रहा हूं भयंकर अविद्या है भयंकर अविद्या वो कुछ नहीं भोग रहा सिर्फ उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है जानकारी मिल रही है हाँ मेरे खाते में इतने पैसे आ गए बस इतना ही अब वो आत्मा में तो घुसने नहीं फिर चाहे मेरे खाते में हो चाहे आपके खाते में हो किसी के खाते में पड़े वहीं पड़े रहेंगे मुझे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं पर फिर भी व्यक्ति अविद्या के कारण उसके पीछे राग द्वेष पैदा होता है और छीना झपटी मारा मारी सारे पाप करता है वो इसीलिए करता है कि उसको इस बेचारे को भ्रांति है तो ये सबके सब क्लेश एक तरह का मिथ्या ज्ञान ही है गड़बड़ ही है बस समझाने के लिए उनके पांच भाग कर दिए थोड़ा सा एंगल चेंज कर दिया दृष्टिकोण बदल दिया और उनके नाम अलग अलग रख दिए तो खास तौर से पर्टिकुलरली जब बुद्धि और आत्मा को हम एक वस्तु मान लेंगे तो इसका नाम अस्मिता क्लेश होगा ये सूत्र ठीक हो गया तो ये भोगवाने का जो साधन है वो है बुद्धि ये भोगवाती है हमको अब भाष्य पढ़ते हैं पुरुषो पुरुषो दृक शक्ति दृक शक्ति बुद्धि बुद्धि दर्शन शक्ति दर्शन शक्ति इति एतयोर इति एतयोर एक स्वरूप एक स्वरूप आपत्ति आपत्ति इव इव अस्मिता क्लेश अस्मिता क्लेश उच्यते उच्यते बस इसी वही बात है जो भी बताई थी मैंने उसको संस्कृत में लिख दिया कि पुरुष जो है अर्थात जीवात्मा वो है दृक शक्ति जो बुद्धि है महत्व तत्व दिखाने वाली शक्ति उसका नाम है दर्शन शक्ति इति तयोग इन दोनों की है तो दो अलग अलग चीजें इन दोनों की एक स्वरूप आपत्ति रेव एक स्वरूप की प्राप्ति सी हो जाना मतलब जीवात्मा ऐसा मानने लगे कि ये दोनों एक ही चीज है ऐसा समझने लगे मानने लगे तो इसका नाम अस्मिता क्लेश है इसको अस्मिता क्लेश के नाम से उच्चते कहा जाता है आगे बढ़ेंगे भोक्तृ भोक्तृ भोग्य शक्तियों भोग्य शक्तियों अत्यंत अत्यंत विभक्त योग विभक्त योग अत्यंत अत्यंत असंकीर्ण योग असंकीर्ण योग अविभाग अविभाग प्राप्त इव प्राप्त इव सत्याम सत्याम भोग भोग कल्पते कल्पते देखो भोग की बता रहे स्थिति कब भोग होता है जब व्यक्ति ये मानता मैं भोग रहा हूँ वो क्या कंडीशन है क्या परिस्थिति है उसको यहाँ समझा है भोक्तृ भोग्य शक्तियों ये दो शक्तियां हैं भोक्तृ शक्ति और भोग्य शक्ति तो भोक्तृ शक्ति तो है भोगने वाला जीवात्मा और भोग्य शक्ति यहां पर है बुद्धि एक और मजेदार बात समझने की यद्यपि बुद्धि भोगने का साधन है थोड़ा विस्तार से विश्लेषण करेंगे तो यहां तीन चीजें बनेंगी एक है भोक्ता कंज्यूमर एक है भोगने का साधन इंस्ट्रूमेंट भोगने का इंस्ट्रूमेंट तीसरा है ऑब्जेक्ट भोगने योग्य पदार्थ खीर पूरी हलवा तो आत्मा भोक्ता हो गया मन बुद्धि ये इंस्ट्रूमेंट्स हो गए ये भोग के साधन हो गए और खीर पूरी हलवा भोग्य पदार्थ हो गया भोगने योग्य साथ वस्तु ऑब्जेक्ट ठीक है स्थिति तो ये है परंतु कहीं कहीं पर दर्शन शास्त्र में कहीं कहीं पर जो भोगने का साधन है उसको भी भोग्य कहा जाता है क्योंकि मैं उसको भी तो इस्तेमाल कर रहा हूं जैसे मैं खीर पूरी को इस्तेमाल कर रहा हूं अपने सुख के लिए हलवा खीर पूरी धन संपत्ति का मैं लाभ ले रहा हूं ऐसे ही मैं इस इंस्ट्रूमेंट का भी तो लाभ ले रहा हूं उस प्रयोजन के लिए कि मैं खीर पूरी का भोग कर सकू तो जिस जिसका मैं लाभ ले रहा हूं वो सब भोग के नाम से कहा जाता है ठीक है तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी भोगे और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी भोगे दोनों भोगे एक डेफिनेशन में एक परिभाषा में साधन भी और साध्य भी दोनों भोगे और इन इनका लाभ उठाने वाला वो है भोगता ऐसे दो भाग करेंगे और कहीं विस्तार से समझाएंगे तो तीन भाग करेंगे भोगने वाला आत्मा भोगने का साधन मन बुद्धि इंद्रिया और भोग्य पदार्थ हो गए खीर पूरी हलवा सोना चांदी मकान मोटर गाड़ी इस तरह से तो अब यहां पर जीवात्मा को तो भोक्तृ शक्ति के नाम से बताया और जो बुद्धि के साधन उसको भोगे के नाम से बताया क्योंकि वो भी एक प्रकार का हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका भी हम भोग ही कर रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं उसका लाभ ले रहे हैं किसी और पर्पज से तो कहते हैं यद्यपि ये दोनों शक्तियां अत्यंत विभक्त योग अत्यंत अलग अलग है बुद्धि अलग चीज है वो जड़ वस्तु है आत्मा चेतन है दोनों अलग अलग चीज है अत्यंत असंकीर्ण योग इनका कोई भी तालमेल नहीं है दोनों का अस्तित्व तो बिल्कुल अलग अलग है अविभाग प्राप्त हो की हो फिर भी ये दोनों अविभाग को प्राप्त हो जाती है अर्थात एक ही बन जाती है एक ही प्रतीत होती है दो चीज एक तो बन ही नहीं सकती रहेंगी तो दो ही पर हमको भ्रांति से ऐसा महसूस होगा कि जैसे ये दोनों एक ही चीजें दोनों चीजें एक ही बन गई है ऐसा प्रतीत होता है जैसे पिछले अविद्या वाले सूत्र में बताया था व्यक्ति जड़ चेतन वस्तुओं को अपनी आत्मा का हिस्सा मानता है उनकी वृद्धि को देख के बड़ा खुश होता है उनके नुकसान को देख के रोना शुरू कर देता है दुखी होता है और वो जैसे ऐसा मानता है जैसे ये कार मेरी आत्मा का ही हिस्सा है कार को चोट लगे तो उसको चोट लगती <laughs> वो ऐसा महसूस करता है जैसे मेरी आत्मा का एक हिस्सा टूट गया या आत्मा पे कोई डेंट पड़ गया ऐसे कार पे डेंट पड़ता है तो जैसे वहां भ्रांति सी है ऐसे यहां भी भ्रांति है वो बुद्धि और आत्मा दोनों को एक मान लेता ये गड़बड़ होती है तो जब ऐसी स्थिति होती है इस कंडीशन में अविभाग प्राप्त हो सत्या इस स्थिति के होने पर भोग कल्पते अब भोग होता है तो जब वो हलवा खाता है खीर खाता है और वो रसना इंद्रिय में आता है रसना इंद्रिय से मन में आता है मन से फिर बुद्धि तक आता है और वो ये मान लेता है बुद्धि और आत्मा तो एक ही चीज है तो ये तो मेरे अंदर ही जा रहा है कि हलवा मैंने खाया खीर मैंने खाई इतना केसर मैंने खाया इतनी सब्जी मैंने खाई इतना दूध मैंने पिया वो सारा मैं खा पी रहा हूं मुझ में जा रहा है ऐसा मानने लगता है बस तब भोग होता है ये है भोग की परिस्थिति जब तक ये स्थिति रहेगी तब तक उसमें आसक्ति बनेगी कि मैं भोग रहा हूं मुझे तो चाहिए चाहिए मैं अपने सुख के लिए अपने लाभ के लिए क्यों ना भोगू मुझे और भी चाहिए भविष्य के लिए भी चाहिए फिर वो छीना झपटी करता है और खूब जमा करता है भविष्य के लिए इतना जमा करता है कि वो छह जन्म भी नहीं खा सकता <laughs> इतना जमा करता है ये सारी मूर्खता है और अविद्या जी बोलिए तो जो चरमदेही होगा हाँ तो उसका तब पूरा अपवर्ग तो नहीं हुआ हाँ तो फिर उसका उसका आगे बढ़ उसका आगे बता रहा वो जो भोग नहीं करता हाँ। उसकी क्या स्थिति होती है वो अगली पंक्ति में पढ़िए स्वरूप स्वरूप प्रतिलंब हेतु प्रतिलंब हेतु तयो तयो कैवल्यमेव कैवल्यमेव भवती कुतो भोग कुतो भोग फिर भोग कैसे हो सकता है उसको समझ में आ गई कि खीर पूरी हलवा मिठाई बस शरीर तक रहेगा इंद्रियों तक रहेगा मन तक रहेगा बुद्धि तक रहेगा आत्मा में तो घुसता ही नहीं आत्मा में तो जाना ही नहीं तो अब वो कैसे मानेगा कि मैं भोग रहा हूं मैं कम भोग रहा हूं आत्मा में तो जा ही नहीं रहा एक मिलीग्राम भी नहीं जा रहा एक मिलीलीटर भी नहीं जा रहा कुछ भी नहीं जा रहा माइक्रो मिलीग्राम भी नहीं जा रहा फिर क्यों खाऊ झगड़ा करे क्यों छीना झपटी करे जीने के लिए चाहिए उतना मिल जाएगा मिल जाएगा तो खा लेंगे नहीं मिलेगा तो ना सही कौन सा कोई हमेशा थोड़ी है पचास करोड़ साल थोड़ी जीना है शरीर <laughs> आज भी मरेगा कल भी मरेगा जब तक मिलेगा तब तक खा लेंगे जब नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे बात खत्म हुई मरना है क्या शरीर छोड़ना बस आत्मा तो मरता नहीं और मैं तो आत्मा हूं तो फिर मेरा तो कुछ बिगड़ता नहीं खाना मिल जाएगा तो खा लेंगे अगर दुनिया वालों को जरूरत होगी मेरी अगर दुनिया वाले ये चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं और मुझसे कुछ लाभ लेना हो उनको तो भैया खाना खिला दो तुम्हें जरूरत हो तो खिला दो नहीं हो तो ना से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो तत्व ज्ञानी ऐसा होता है वो दुनिया के लिए जीता अपने लिए नहीं जी रहा वो कहता है आपको इस गाड़ी से लाभ उठाना हो तो पेट्रोल डाल दो तो गाड़ी चलेगी तो आपको लाभ होगा नहीं डालोगे तो हिम्मत पता जाएगी आपका नुकसान होगा मेरा क्या जा रहा है मैं तो आत्मा हूं मुझे तो समझ में आ गई मेरा तो कुछ बिगड़ता नहीं इसलिए वो अपने लिए नहीं खाता पीता अपने लिए काम नहीं करता वो दुनिया के लिए करता है तो दुनिया वाले अपने स्वार्थ के लिए अपने लाभ के लिए उसको खिलाते हैं उसको सुलाते हैं बढ़िया बिस्तर देते हैं बढ़िया कमरा देते हैं फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन सुविधा देते हैं बढ़िया ट्रेन में भेजते हैं बढ़िया फ्लाइट का टिकट देते हैं <laughs> वो लोग अपने फायदे के लिए करते हैं तो तत्व ज्ञानी इन चीजों का भोग नहीं करता वो कहता है स्वरूप प्रतिलंब हेतु तो। दोनों का स्वरूप उसको ज्ञान हो गया बुद्धि अलग चीज है आत्मा अलग चीज है तो तय कैवल्य में फिर तो उसका मोक्ष ही हो जाता है मतलब वो दोनों पृथक पृथक समझ में आ गए तो छुटकारा हो गया उसको ये बात अच्छी तरह क्लियर हो गई कि मैं कुछ नहीं खा रहा ये शरीर बुद्धि मन इंद्रियों तक ही रह जाएगा बस मैं तो इससे सर्वथा निर्लेप हूं ऐसा वो समझ लेता है फिर भोग कहां बचा फिर नहीं बचा जी हाँ मांगेगा और डिमांड करेगा लाओ भाई भूख लगी खाना लाओ खाना मिल गया खा लिया बस बात खत्म हो गई वो ये नहीं मानेगा कि ये खीर पूरी मुझ में जा रही है अर्थात आत्मा में जा रही है ऐसा नहीं मानता आम आदमी ये मानता है खीर पूरी मैंने खाई ये अंतर है दोनों आम आदमी ये सोचता है ये खीर मैंने खाई है और योगी व्यक्ति क्या मानता है मैंने नहीं खाई ये तो शरीर में चली गई मैं तो आत्मा हूं आत्मा में तो कुछ गया नहीं फिर मुझे कोई आसक्ति नहीं उसमें कोई राग नहीं सिर्फ जीवित रहने के लिए मुझे खाना है खीर मिल गई तो खीर खा लेंगे हलवा मिला तो हलवा खा लेंगे दाल मिली तो दाल खा लेंगे पापड़ मिला तो पापड़ खा लेंगे जो मिल जाएगा खा लेंगे बस इसको जिंदा रखना इतनी बात और कोई इसका सुख स्वाद कुछ नहीं करना वो सुख लिया तो चार दो खाएंगे ना फिर फंसेंगे उसमें इसलिए सुख लेना नहीं सुख लिया तो फिर राग होगा राग होगा तो द्वेष होगा द्वेष होगा तो अविद्या बढ़ेगी अविद्या बढ़ेगी तो जन्म जन्म का चक्कर चालू ही रहेगा मोक्ष होगा ही नहीं इसलिए वो सुख लेता ही नहीं झंझट ही खाता सिर्फ जीने के लिए खाता है बहुत नाप तोल करके खाता है और बहुत सोच सोच के खाता है कि ये चीज मुझे फायदा करेगी तो खाऊं शरीर को स्वस्थ बनाए रखेगी तो खाऊं अगर रोगी बनाएगी तो नहीं खाऊं बस इसको जीवित कर चालू रखने के लिए जीवन चालू रखने के लिए ही खाता बस और कोई उद्देश्य नहीं उसका जी बोलिए हमारे ऐसे लोग हैं त्रिशंक जी तो पता चला है शाब्दिक ज्ञान हम्म। तो उनकी अवस्था अब वो क्या करेंगे आज समझ में आया शाब्दिक रूप से कि जो भी हम खाना खाते हैं वो आत्माओं को तो मिलता नहीं शरीर मन बुद्धि इंद्रियों तक ही रह जाएगा तो जब मुझे तो मिलता नहीं मैं तो आत्मा हूं तो अब मुझे इसके पीछे भागने की क्या जरूरत है अब लोभ नहीं करना है मिल गया तो ठीक है नहीं मिला तो ना सर अब ये सोचना शुरू कर देंगे वो लोग नए लोग अब ऐसा उनको सोचना शुरू करना चाहिए और इसका परिणाम यह आएगा कि उनका लोभ छूट जाएगा नहीं मिला तो क्रोध भी नहीं आएगा द्वेष भी नहीं रहेगा राग भी खाता हूं द्वेष भी खाता हूं दोनों खाता हूं ये लाभ होगा अगर चिंतन करेंगे रोज दोहराएंगे इस बात को तो धीरे धीरे धीरे ये परिणाम आना शुरू हो जाएगा और उनका भी तत्व ज्ञान बढ़ता जाएगा अविद्या घटती जाएगी अस्मिता क्लेश घटता जाएगा राग द्वेश घटता जाएगा शांति से जिएंगे मिल गया तो ठीक है नहीं मिला तो कोई बात नहीं चलेगा ऐसे बढ़ेगा ये सोच चलिए तथा चौकतम तथा चौकतम ऐसा ही कहा है किसी आचार्य ने उसका वचन बताते हैं बुद्धिता बुद्धिता परम परम पुरुषम पुरुषम आकार आकार शील शील विद्यादिभिर विद्यादिभिर विभक्तम विभक्तम अपुष्यन अपश्यन अपश्यन तत्र मोहेन मोहेन तो किसी आचार्य ने वचन इस संदर्भ में प्रस्तुत किया है अस्मिता क्लेश के समझाने में तो वो कहते हैं बुद्धिता परम पुरुष पुरुष जीवात्मा बुद्धिता परम बुद्धि से अलग है वास्तव में पुरुष अलग है आत्मा अलग है बुद्धि अलग है पुरुष चेतन है बुद्धि जड़ है आकारशील विद्या आदि भी विभक्तम इन इन कारणों से दोनों में विभाग है पृथकता है अंतर है दोनों का आकार तो यहाँ आकार कार्य करेंगे स्वरूप जीवात्मा तो है निराकार उसका आकार तो है नहीं इसलिए यहाँ आकार शब्द इस बात के लिए है कि दोनों का स्वरूप भिन्न भिन्न है एक जड़ है एक चेतन है ठीक है फिर शील शील माने स्वभाव स्वभाव क्या है स्वभाव यह है कि आत्मा नित्य है और बुद्धि अनित्य है बुद्धि भी पैदा हुई है बनाई गई है और जब प्रलय होगी तब बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी टूट फूट जाएगी सृष्टि के आरंभ में बुद्धि बनाई जाती है और प्रलय के समय टूट जाती है तो इसलिए ये है अनित्य जबकि जीवात्मा है नित्य तो ये स्वभाव में भी अंतर है फिर विद्या आदि भी अच्छा जीवात्मा चेतन है और बुद्धि जड़ है तो विद्या मतलब ज्ञान का भी अंतर है दोनों एक ज्ञानवान है एक बिना ज्ञान वाला है ऐसे इन इन कारणों से इनमें भिन्नता है विभक्तम ऐसे ऐसे कारणों से पृथक होते हुए भी पुरुष को जो कि बुद्धि से अलग चीज है उसको अपुष्यन अपश्यन उसको अलग न देखता हुआ जो व्यक्ति अस्मिता क्लेश से ग्रस्त है वो पुरुष जीवात्मा को बुद्धि से अलग न देखता हुआ मोहन मोह से अविद्या के कारण तत्र आत्मबुद्धि कुरियात उसी बुद्धि आत्मा बुद्धि में आत्मबुद्धि कर लेता है मतलब आत्मा मान लेता है आत्मा समझ लेता है बुद्धि को जबकि है अलग अलग इस तरह से उसको अस्मिता क्लेश कहते हैं तो सार यही हुआ कि आत्मा और बुद्धि दो अलग अलग चीजें हैं और इनको एक मान लेना ये अस्मिता क्लेश है अब ये ऐसा क्लेश है इसकी उपस्थिति में जीवात्मा ये मानता है मैं भोगता हूं मैं खा रहा हूं आई एम कंज्यूमर मैं सब चीजें भोग रहा हूं जबकि भोग कुछ नहीं रहा सिर्फ इंफॉर्मेशन हो रही है सिर्फ जानकारी हो रही है और उस जानकारी से कोई फर्क नहीं पड़ता आत्मा का मूल स्वरूप तो वैसा ही रहने वाला पर जितनी ये फालतू की जानकारी करता रहेगा उतना ज्यादा फंसेगा बंधन में इसलिए अच्छा है कम जानकारी करें वो बहुत इमरजेंसी बहुत जितनी मतलब मिनिमम जरूरी हो बस उतनी ही जानकारी करें जिंदा रहने के लिए बस इतना ही करें बाकी तो अपनी एनर्जी बचाए अपनी शक्ति को बचाए समय को बचाए और अपना पठन पाठन में समाज सेवा में परोपकार में ध्यान उपासना में समाधि में इन कामों में लगाए जो असली काम है करने का वो करते नहीं लोग बस सारा दिन ऐसे खाने पीने में पैसे कमाने बिगाड़ते थे वो उस समय का कोई लाभ ही नहीं उठाते जो असली काम करना था वो तो किया ही नहीं वो हर बार ऐसे ही रह जाता बचपन खेलकूद में बीत जाता है जवानी में फिर थोड़ी नींद आती है जोश होता है काम करता है थक जाता है आदमी रात को अच्छी तरह सोता है अब वो बस ऐसे पैसे कमाने और खाने पीने में निकल जाती है जवानी बुढ़ापे में थोड़ी समझ आती है पचास साल के बाद थोड़ी समझ आती है जीवन को कैसे जीना चाहिए पचास साल तक तो आदमी को होश ही नहीं होता चालीस चालीस तक तो कम से कम चालीस तक तो उसको समझ नहीं आती कैसे जीना चाहिए चालीस के बाद फिर थोड़ी थोड़ी उसको क्लियरिटी होती है कैसे जीना चाहिए और पचास तक वो पक जाती है वो बुद्धि उसकी पक जाती है हाँ अब पूरी तरह क्लियर हो गए कैसे जीना चाहिए पचास तक अब पचास के बाद उसको जब समझ आई कि जीवन कैसे जीना चाहिए कहाँ समय लगाऊ कहाँ शक्ति लगाऊ सब शक्ति खत्म हो गई पचास के बाद बीमारी शुरू हो जाती है अब वो चाहते हुए भी नहीं कर पा रहा बस फिर पश्चाताप कहता चलो अब तो जीवन निकल के अगली बार करेंगे अगले जन्म में ही होगा बस बुढ़ापे में ऐसे ही पश्चाताप कर करके बूढ़ा होके मर जाता है और जैसे ही अगला जन्म होता है फिर बच्चा बन गया फिर खेलकूद सब भूल गया पिछली बातें बस फिर खेलकूद में लग जाता है फिर वो जवानी में पैसे कमाओ और खाओ पियो पचास साल में अकल आती है फिर शरीर शक्ति खत्म हो जाती है ऐसे ही लाखों जन्म चलते रहते हैं और व्यक्ति का मोक्ष नहीं हो पाता तो बार बार जन्म लेता है बार बार दुख उठाता है बार बार उसको समझ आती है थोड़ी थोड़ी समझ आती रहती है पचास साल में पचास में पचपन में साठ में वो भी किसी की साठ में आती है किसी की पचास में वो हर एक की एक जैसी नहीं होती ये तो एक मोटा सिद्धांत है एक रफ नियम है ऐसे हर जन्म में मार खाते खाते खाते खाते बुढ़ापे में थोड़ी थोड़ी समझ आती है तो वो समझ इकट्ठी होती रहती है बढ़ती रहती है फिर कई जन्मों तक मार खाते खाते फिर बचपन से उसको होश आता है कभी कभी किसी किसी जन्म में वो पुराने संस्कार साथ चलते हैं फिर कभी कभी किसी जन्म में वो बचपन से लगता है इस काम में कि हाँ ये काम ठीक है ये करना वो एक्सेप्शन लोग होते हैं कोई कोई होते हैं आम आदमी तो ऐसे ही चलते खाओ पियो बूढ़े होके मर जाए बस तो ये बात हो गई पूरी छठे सूत्र की अब सातवां सूत्र अगला क्लेश है राग इसके बारे में बताते हैं सूत्र सात बोलिए सुखानुषयी सुखानुषयी राग राग सूत्र का अर्थ है सुख के पश्चात रहने वाला अनु पश्चात शयी शयन करने वाला रहने वाला जो संस्कार है जो क्लेश है उसका नाम है राग सुख भोगने के बाद होगा अनुषय बाद में होने वाला पहले नहीं होगा सुख होगा और राग हो गया चाहे आप वो सुख किसी भी इंद्रिय से भोगे चाहे मन से भोगे चाहे इंद्रियों से भोगे चाहे सुख की कल्पना भी क्यों ना कर लें बस आपको समझ में आ गया कि इस चीज में सुख है बस आपको राग हो जाएगा चाहे प्रत्यक्ष भोगी ना भी हो इंद्रियों से नहीं भोगी बस सुन लिया समझ में आ गया किसी ने समझा दिया बुद्धि में बिठा दिया कि हाँ ऐसा करने से सुख होगा बस सुनते ही आपको राग हो जाएगा वो हल्का होगा और स्वयं इंद्रियों से भोग लिया तो फिर तीव्र होगा क्योंकि जो प्रत्यक्ष अनुभव है वो बलवान होता है शाब्दिक ज्ञान कमजोर होता है अनुमानिक ज्ञान भी कमजोर होता है जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है वो बहुत बलवान होता है तो यदि शाब्दिक ज्ञान से आपने सुख का विचार किया कि अमुक वस्तु में सुख है तो आपको राग तो हो जाएगा पर वो हल्के स्तर का होगा अनुमान से आपने मान लिया कि हाँ इस चीज को यदि हम प्राप्त करेंगे तो इसमें सुख मिलेगा जैसे कई लोग सोचते हैं कि हम हम पॉलिटिक्स में जाए ये पॉलिटिक्स वाले पॉलिटिशियन लोग ये मंत्री मिनिस्टर लोग कार में आते हैं फर्स्ट क्लास लाल बत्ती वाली गाड़ी होती है आगे पीछे इनके पांच पांच गाड़ियां चलती हैं उसमें पुलिस वालों की भी होती है मेडिकल भी डॉक्टर्स की भी होती है और कमांडोज भी होती है जो भी होते हैं सब बढ़िया सुरक्षा होती है लोग सैल्यूट मारते हैं पुलिस वाले ट्रैफिक पुलिस वाले भी रास्ता खाली कर देते हैं चलो भाई चलो मंत्री जी आ रहे हैं इनको जाने को तो उसको देख देख के व्यक्ति अनुमान करता है मैं भी कभी मिनिस्टर बन गया तो मजा आ जाए <laughs> बड़ा सुख मिलेगा ऐसा सोचता है तो वो अनुमान करता है इसमें भी तो उसको राग होता है और अगर कोई साक्षात बन ही गया हो मंत्री उसने तो प्रत्यक्ष भोग के देख लिया सो उसको जब मंत्री पद से हटाते हैं तब देखना कितना दुख होता है <laughs> वो छोड़ना नहीं चाहता पर बेचारे को बहुत दुख होता है वो छूट छूट जाता है क्या करे हमेशा तो कोई रह नहीं सकता मंत्री तो जो प्रत्यक्ष सुख भोग लेता है तो उसका राग तीव्र होता है वो बहुत दुख देता है तो इस तरह से ये राग एक क्लेश जो सुख भोगने के बाद होता है सुख आप चाहे शाब्दिक रूप से भोगो अनुमानिक रूप से भोगो या प्रात्यक्षिक रूप से भोगो चाहे कल्पना भी क्यों ना कर लो सुख की कल्पना भी कर ली तो भी राग हो जाएगा ये आपने कल्पना कर ली शायद वो सिद्ध हो भी नहीं पाए मान लो सारे जीवन में भी तो भी आपने कल्पना कर ली क्या कर ली एक सपना देखा कि मैं कभी भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं तो मजा आए कभी भारत का प्रधानमंत्री बन गया तो बस फिर मजा आ जाएगा अब ये सिर्फ कल्पना है शायद आपके जीवन में सिद्ध नहीं हो पाएगी आपकी रुचि भी नहीं कोई लक्ष्य भी नहीं है कोई योजना भी नहीं है कोई विचार भी नहीं है फिर भी किसी ने कह दिया और आपने एक सपना सा देख लिया कल्पना कर ली कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो देश का भला कर दू तो ऐसा भी यदि सोच लिया तो भी उसमें थोड़ा सा राग हो जाएगा पर वो बहुत हल्का होगा काल्पनिक है कल्पना से आपने उसका सुख ले लिया बहुत हल्का सा राग होगा हो तो जाएगा इसलिए सूत्रकार ने कहा सुखानुशयी रागा सुख भोगने के पश्चात जो क्लेश उत्पन्न होता है उसको राग कहते हैं एक व्यक्ति ने पूछा कि ये सुख के बाद राग हो गया तो ये तो सुख ही भोग रहा है इसमें दुख कहाँ है क्लेश में तो दुख होता है क्लेश का तो मतलब ये दुख देने वाला तो ये तो सुख भोग रहे हो तो यहां दुख की तो कोई चर्चा ही नहीं है फिर इसको क्लेश क्यों कह रहे उत्तर यह है कि जिस समय सुख हो रहा है से पीने से देखने से घूमने से फिरने से किसी भी चीज से जिस समय सुख हो रहा है वो तो हम सुख भोग रहे हैं ये तो ठीक हो गया पर सूत्रकार कह रहा है सुख भोगने के पश्चात उसके पश्चात जो संस्कार बनता है मन पर जो उसमें अटैचमेंट बनती है जो आसक्ति बनती है उसका नाम राग है और ये आपको दुख देगा कब देगा जब वो सुख दोबारा आपको नहीं मिलेगा तब ये दुख देगा जिस वस्तु का आपने सुख होगा अभी तो मिल रहा है अभी तो आप सुखी हैं जिस दिन नहीं मिलेगा कोई छीन ले जाएगा कोई तोड़ फोड़ देगा कोई बिगाड़ देगा कोई नष्ट कर देगा उस दिन पता चलेगा ये आपको राग कितना दुख देता इसलिए व्यापार में जिन व्यापारियों को नुकसान होता है पैसे का तब देखना कितना सुखी होते हैं अब पैसा चला गया ना दुखी हो किसी ने झूठा आरोप लगा दिया अपमान कर दिया बदनाम कर दिया अब दुख होगा वो सुख नहीं मिल रहा प्रशंसा वाला आज तो बदनामी का दुख भोगना पड़ रहा है जी बोलिए यही प्रश्न में पूछने वाला था हम्म। तो अभी जो ये राग के कारण दुख हो रहा है या द्वेष जिसने छीन लिया हाँ, वो अलग है वो कैसे वो अलग है दोनों में डिफरेंस है अंतर क्या है एक आदमी बड़ा सेठ था उसके पास फरारी कार थी तीन करोड़ बहुत सुख लिया व्यापार में घाटा हो गया लॉस हो गया कोई पॉलिटिक्स का ऊंचा नीचा हो गया शेयर बाजार में फेर बदल हो गया कोई इंटरनेशनल मार्केट में फर्क आ गया तो किसी कारण से उसको व्यापार में घाटा हो गया अब घाटा हो गया तो उस बेचारे का बहुत सारा नुकसान हो गया उसको कार बेचनी पड़ी लोगों का पैसा ले रखा था कर्जा उतारने के लिए कार बेचनी पड़ी कार बिक गई तो जो पैसा आया उससे कर्जा उतर गया पर अब जो कार चली गई अब उसकी इच्छा तो होती है वापस वो उस कार का सुख लेने की और वो अब मिलती नहीं अब जो उसको परेशानी है दुख हो रहा है अब उसको मर्सिडीज में जाना पड़ता है फरारी तो भाई वो तीस पैंतीस लाख की मर्सिडीज में जैसे तैसे टाइम पास कर रहा हो अब जो उसको कष्ट हो रहा है ये राग उसको परेशान कर रहा है उसको फरारी कार का जो राग था वो अब परेशान कर रहा है मुझे इतनी अच्छी सुविधा वाली गाड़ी क्यों नहीं मिल रही ये जैसी तैसी गाड़ी में काम कर रहा हूँ चला रहा हूँ टाइम पास कर रहा हूँ वो मर्सिडीज को भी जैसी तैसी समझ रहा है तो है आज आदमी तो सब नहीं देखता रहा था पता नहीं जिंदगी में कभी खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे पर उसके लिए तो फरारी कार थी ना उसके हाथ में तीन करोड़ की वो चली गई तो अब मर्सिडीज तो उसके लिए जैसी तैसी है तीस पैंतीस लाख की गाड़ी तो कुछ भी नहीं उसके सामने इस तरह से अब उसको फरारी कार वाला जो राग है वो अब दुख दे रहा है अब द्वेश कैसे दुख देगा तो उसके पास फरारी कार है है बिकी नहीं है ठीक ठाक है व्यापार में कोई घाटा भी नहीं पर चोर उसकी कार चुरा के ले गए फरारी कार तीन करोड़ ठीक है अब जो उसको दुख हो रहा है ये द्वेष वाला दुख है जो चोर कार चुरा के ले गए छीन झपट के ले गए और वो पकड़ में भी नहीं आ रहे पुलिस की आज में नहीं आ रहे उस बेचारे को बड़ा कष्ट हो रहा है उन चोरों के प्रति बहुत क्रोध आ रहा है गुस्सा आ रहा है कि हमारी संपत्ति छीन के ले गए अब जो उससे दुख हो रहा है इस दुख भोगने के बाद अब उन, उनसे द्वेष हो रहा है चोरों से जो छीन कर ले गए तो वो राग का दुख अलग है और द्वेष का दुख अलग है दोनों का दुख अलग है दोनों क्लेश है राग कब दुख देता है जब वो वस्तु नहीं मिलती जब पहले सुख मिल रहा था अब वो सुख नहीं मिल रहा उस सुख के न मिलने पर राग दुख दे रहा है और द्वेष कब दुख देता है दुखदायक वस्तु के उपस्थित होने पर वो दुख देता है राग उस वस्तु की अनुपस्थिति में दुख देता है खीर रोज खाते थे या कभी हफ्ते में दो बार खाते थे और अब कह दिया भाई एक महीने तक खीर बंद रहेगी एक महीने तक किसी को खीर नहीं मिलेगी अब जब अगला दिन आया खीर खाने का नंबर रूटीन में तो खीर नहीं मिली तो खीर अनुपस्थित है इसलिए अब हमको कष्ट हो रहा है ये, ये राग हमको दुख दे रहा है खीर के न मिलने पर अनुपस्थित है वो और जिस आदमी ने आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया आपको पता भी चल गया कि ये आदमी इसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया ऑफिस में बदनाम किया ठीक है वो व्यक्ति जब आपके सामने आएगा उसको सामने आते ही आपको द्वेष उठेगा क्रोध आएगा तो द्वेष कब उठ रहा है उस वस्तु की उपस्थिति में जिससे दुख हुआ जिस वस्तु से दुख हुआ उसकी उपस्थिति में द्वेष उठता है जिसमें राग हुआ था उसकी अनुपस्थिति में राग उठता है और उससे दुख होता है दुख तो दोनों ही दे रहे हैं बस पद्धति में थोड़ा सा अंतर तो ये भी दुखानुशयी है तो दुख के बाद द्वेष द्वेष हाँ द्वेष दुखानुशयी है और राग सुखानुशयी है सुख भोगने के बाद राग दुख भोगने के बाद द्वेष जिसने चोरी की जिसने बदनाम किया वो व्यक्ति सामने आएगा तो आपको गुस्सा आएगा अथवा बैठे बैठे आपने याद कर लिया तो भी गुस्सा आएगा बैठे बैठे याद कर लिया है देखा भी नहीं उसको अपने कमरे में बैठे बैठे आपने उसको याद कर लिया जिसने आपका नुकसान किया था बस आपका द्वेष शुरू हो जाएगा चाहे वो मन में उपस्थित हो जाए चाहे आंख के सामने उपस्थित हो जाए बस उपस्थित होते ही द्वेष दुख देने लगे हम्म। बोलिए और अगर उस व्यक्ति के किसी संबंधी ने उसके उससे भी ज्यादा कीमती गाड़ी खरीदी हम्म। अगर उसके पास फेरारी है तो उसने और बहुत बढ़िया खरीदी हाँ, तो उसको फिर उसे भी द्वेष ही कहेंगे हाँ वो द्वेष होगा अब उसको दुख होना शुरू हुआ पहले इस घटना से उसको दुख होगा कि पहले तो फर्स्ट नंबर सेट में था पूरे पुणे सिटी में पहले मेरा नंबर मेरा ही था अब ये मुझसे आगे निकल गया ये मुझसे आगे निकल गया अब लोग इसकी प्रशंसा करेंगे और मेरा नंबर सेकंड हो गया इस बात से उसको दुख होगा तो इस कारण से उसको जो दुख हुआ अब इस दुख के भोगने के बाद उसको उस व्यक्ति से द्वेष हो जाएगा संबंधी से जिसने उससे भी बढ़िया ऊंची कार खरीद ली अब उससे द्वेष होगा तो भोगने के बाद जी हाँ बोलिए ठीक और मैंने सम्यक आनंद लेते हुए उसका श्रवण किया ठीक है उसका ना अतिरिक्त किया ना उसके कम भी नहीं खाया ज्यादा भी नहीं खाया हाँ। उचित मात्रा में खाया ठीक है उसका शरीर को आनंद ले लिया ठीक है और छूट गया पूरा हो गया हाँ ठीक है अब राग राग अगर सुख लिया है तो राग बनेगा उचित मात्रा में खाया और आनंद अनुकूल भोजन खाया और सुख लेकर के खाया आत्मानंद में खा लिया हाँ हाँ हाँ आत्मा सुख ले लिया हाँ बहुत ही आत्मा तृप्त हो गया हाँ हाँ आपने सुख लिया बस मुझे ये बात पूछनी आपसे क्या आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कि खीर खाते समय सुख लिया अन्न ग्रहण तो शरीर के लिए आवश्यक उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ मैं रोटी खाना अलग बात है सुख लेना अलग बात है इसलिए मैं दोनों में डिफ्रेंशिएट करना करना चाहता हूँ खीर खा लो कोई आपत्ति नहीं है पर खीर बिना सुख लिए भी खाई जा सकती है और सुख लेकर भी खाई जा सकती है का आनंद तो हाँ ठीक है तो खाते समय उसका तो सुख भूलना ही नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं है यही तो समझना है यही तो समझना है कि जिहुआ से रसना से हम खीर खाएंगे और उसमें चीनी डाल रखी है मिठास है और मीठी भी लगेगी तो भी हम सुख नहीं लेंगे ऐसा भी हो सकता है मीठी लगते हुए भी सुख नहीं लेंगे और मीठी लगते हुए सुख भी लेंगे दो अलग अलग स्थितियां हैं दोनों को सुनिए एक दृष्टांत से समझ में आ जाएगी एक सेठ जी खाना खा रहे थे दोपहर का टाइम लंच कर रहे थे बढ़िया खीर पूरी हलवा मिठाई ये वो सब खा रहे थे रायता पापड़ सब चीजें थी बड़ा सुख ले लेकर के खा रहे थे और आधा भोजन खा चुके अच्छा मजा लेकर सुख लेकर के खाया बीच में एक टेलीफोन आया सेठ जी पचास लाख रुपए का नुकसान हो गया जो माल आपने समुद्री जहाज से भेजा था विदेश में वो डूब गया और बीमा भी नहीं कराया था मुझे मिलेगा पूरा पचास लाख डूब गया सेठ जी को समाचार मिल गया पचास लाख का नुकसान फोन बंद कर दिया अब जो भोजन खा रहे थे आधा खा चुके थे आधा बाकी है अब जो भोजन खाएंगे ये समाचार सुनने के बाद अब वो उतना सुख ले पाएंगे जितना पहले ले रहे थे अब नहीं ले पाएंगे ना देखो अब बिना सुख लिए खा रहे और खाना वही है खाना चेंज नहीं किया खाना बदला नहीं है वही किए खा रहे वही हलवा खा रहे अब सारा सुख गायब हो गया अब तो कहा टेंशन चढ़ गई सर में ये क्या मुसीबत है पचास लाख का नुकसान हो गया कुछ भी हाथ में नहीं आया अब बिना सुख लिए खा रहे मीठा तो लगेगा अब भी वही खीर खाएंगे इस न्यूज के सुनने के बाद वो मीठी फिर भी लगेगी पर अब उसका सुख नहीं ले पाएंगे अब अब उनका दिमाग कहीं और घूम गया पहले सुख लेने में लग रहा था अब दिमाग कहीं और चल रहा अब सुख नहीं ले पाएंगे तो योगाभ्यास में हमको ऐसे ही खाना खाना दुखी होकर के नहीं खाना ध्यान रखना दुखी होकर के नहीं खाना क्या मुसीबत है ओहो खाना पड़ेगा बहुत भयंकर मुसीबत कैसे खाऊं गले से उतरता ही नहीं ऐसे नहीं खाना खाना है प्रेम से खाना है जो भोजन आएगा खाएंगे बस खा लेंगे जीने के लिए खा लेंगे जैसे कार में पेट्रोल डालते हैं जब कार में पेट्रोल डालते हैं तब खुशी होती है क्या नहीं होती ना एक एक मजबूरी है कार में पेट्रोल डालना ही पड़ेगा नहीं तो चलेगी नहीं जैसे वहां खुशी नहीं होती कोई सुख नहीं मिलता कार में पेट्रोल डालने में ऐसे ही भोजन को पेट्रोल समझ के डाल लेंगे शरीर में कोई खुशी नहीं हो रही एक फ्यूल है डालना इसके बिना चलेगा नहीं तो बिना सुख लिए भी खाया जा सकता है अभ्यास करना पड़ेगा शुरू शुरू में बड़ा कठिन लगेगा हमको आज से बत्तीस साल चौंतीस साल पहले गुरु जी ने बताई ये बात जब हम उनके संपर्क में गए तो शुरू शुरू में गुरु जी कहते थे मैं बादाम खाता हूँ और सुख नहीं लेता हमने कहा गुरु जी हमारी समझ में नहीं आई <laughs> आप क्या बोल रहे हैं हमारी समझ में नहीं आई आप बादाम खाते और सुख नहीं लेते कैसे हो सकता है हमारी भी समझ में नहीं आई आप खीर खाते हैं और कहते हैं मैं सुख नहीं लेता हमारी समझ में नहीं आई ऐसे वो बताते थे तो हमको नहीं आती थी समझ में फिर दो चार साल सुनते रहे सुनते रहे सीखते रहे पूछते रहे आप कैसे इस सुख को ब्रेक लगाते हैं हमको भी सिखाओ कुछ उपाय बताइए हम कैसे कैसे इसको ब्रेक लगाए बोले योगाभ्यास करना है तो ये ब्रेक लगानी पड़ेगी हमने कहा बताइए कैसे लगाए तो कई उपाय बताए तो उन उपायों का हमने भी अभ्यास किया करीब करीब पंद्रह साल पंद्रह वर्ष तक जम के मेहनत की इससे टक्कर लेके सुख नहीं लेना खीर खानी है सुख नहीं लेना है हलवा खाना है सुख नहीं लेना बादाम खाना है सुख नहीं लेना घी खाना है सुख नहीं लेना दूध पीना है सुख नहीं लेना खूब पंद्रह साल मेहनत की मन से उसका विरोध किया नहीं लेना पंद्रह साल में जाकर के कुछ सफलता मिली कि हाँ अब हम बिना सुख लिए हम भी सीख गए खाना अब हम बिना सूख लिए खा लेते हैं पंद्रह साल मेहनत की तब जाके बात करें तो उसमें एक उपाय ये था कि मन से विरोध करो खाने से पहले ही सुबह से तैयारी करो आज दोपहर में खीर मिलेगी पता है गुरुवार को खीर बनती है और संडे को हलवा बनता है पता है तो रूटीन में नियम बना बना रखा है तो आज गुरुवार है पता चल गया तो दोपहर में खीर बनेगी तो सुबह से ही आठ नौ बजे से तैयारी शुरू कर देते थे कि खीर मिलेगी बारह बजे पर सुख नहीं लेना उसकी तीन घंटे तैयारी करते थे और जब खीर आती थी सामने तो खा लेते थे और मन को वहां से हटा लेते थे कि सुख नहीं लेना बस अंदर डाल दो शरीर की शक्ति के लिए खा लो कोई बात नहीं ऐसे पंद्रह साल मेहनत की ये एक उपाय था दूसरा उपाय यह था गुरुजी ने बताया कि फरमाइश मत करो फरमाइश मत करो यदि आप फरमाइश करते हैं तो क्या मतलब आप सुख लेना चाहते हैं तभी तो कह रहे हैं आज पनीर के पकौड़े बनाओ आज समोसे बनाओ आज कचौरी <laughs> मंगाओ आज पालक पनीर बनाओ आज राजमा बनाओ आज चावल बनाओ आज कड़ी बनाओ आज ये फलाने आइटम गाय की फरमाए कोई फर्क नहीं है हाँ कम है शक्कर और पेट में रोग हो जाएगा गैस बन जाएगी पेट फूल जाएगा तो शक्कर ऊपर से डाल लो उसमें मनाई नहीं है रोगी नहीं होना रोगी नहीं होना दाल में नमक कम है और बिना नमक की दाल खाएंगे पेट फूल जाएगा भोजन पचेगा नहीं कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी कब्जी हो जाएगी गैस सर पे चढ़ जाएगी नींद नहीं आएगी अगर ऐसा होता हो तो नमक डाल के खा लो कोई आपत्ति नहीं है वो स्वास्थ्य के लिए खा रहे हम सुख लेने के लिए नहीं और, और नुकसान नहीं कर रही हाँ, सिर्फ खाते थोड़ा सा स्मेल आ रही है स्मेल आ रही और वो तकलीफ दे रही हाँ अच्छा अच्छी नहीं लग रही हाँ। लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है मान लिया थोड़ी सी स्मेल आ रही बस तो खा सकते हैं कोई समस्या नहीं कभी दाल में नमक कम है खा लेंगे कोई समस्या नहीं टेस्ट के लिए नहीं खाना है स्वास्थ्य के लिए खाना है वो वस्तु स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली ना हो बस इतनी शर्त है थोड़ा ऊंचा नीचा हो कोई बात नहीं कभी दाल में नमक कम होगा तो भी चल जाएगा थोड़ा ज्यादा पड़ गया तो भी चल जाएगा मान लो इतना ज्यादा होगा खाया ही नहीं जा रहा तो थोड़ा उसमें घी डाल लेंगे थोड़ी दही डाल लेंगे कुछ और चीज मिक्स कर लेंगे ताकि खा जाए उससे एलर्जी नहीं करेंगे उसको गाली नहीं देंगे उसको उठा के फेंक नहीं देंगे उस पर गुस्सा नहीं करेंगे उससे द्वेष नहीं करेंगे पकाने वाले से झगड़ा नहीं करेंगे क्या तुम्हारा दिमाग खराब है तुम्हें बीस सालों को रोटी बनाते आज तक इतना नहीं समझ में आया कि नमक कैसे डालते हैं <laughs> ऐसे झगड़ा नहीं करेंगे कोई बात नहीं नमक डल गया तो नहीं क्या हो गया थोड़ी दही डाल दो बात बराबर होगी बैलेंस हो जाएगा तो दुखी नहीं होना जैसा भी मिले भोजन खुश होकर के खा लेना है खुश होने का मतलब आसानी से चुपचाप प्रेम से खा लेना आसक्ति नहीं सुख नहीं लेना तो एक उपाय ये बताया कि उसकी फरमाइश मत करो जो मिल गया चुपचाप खा लो जैसा मिल गया ठीक है खा लो आज जो भी मिला प्रसन्नता से भगवान का प्रसाद मान के खा लो ये एक उपाय था तीसरा उपाय यह था कि कभी कभी उस चीज को खाना बंद कर कुछ दिन के लिए एक महीने के लिए घी बंद व्यायाम करेंगे ठंड बैठक लगाएंगे जो रूटीन में लगाते रोज जैसी लगाते वैसी ही लगाएंगे और ऊपर से सब्जी में ऊपर से घी डाल के खाते थे हम आज से पच्चीस तीस साल पहले जब हम पढ़ते थे और व्यायाम करते थे और दंड बैठक लगाते थे तो अपना घी का डिब्बा रखते थे साथ गुरुकुलों में जब पढ़ते थे तो एक एक महीने के प्रयोग करते थे हम कि दंड बैठक पूरे लगाएंगे और जो ऊपर से घी डालते हैं तीस ग्राम चालीस ग्राम दाल सब्जी में एक महीने तक ऊपर से घी नहीं डालेंगे और जो दाल में छोंक में लगता है बस उतना और फिर देखते हैं कैसा लगता है जीवन ठीक से चलता है कि नहीं कष्ट तो नहीं होता खराब तो नहीं लगता कि आजकल घी नहीं मिल रहा कहीं परेशानी तो नहीं हो रही ऐसे प्रयोग करते थे घी है हमारे पास हम खा सकते हैं पर जानबूझ के बंद कर रखा है नहीं खाएंगे अपना परीक्षण करने के लिए कि हमें घी खाने में राग तो नहीं उसमें आसक्ति तो नहीं इसके बिना हमें कैसा लगता है तो ऐसे कई प्रयोग किए एक बार घी बंद कर दिया अगले महीने दूध बंद कर दिया एक महीने तक दूध नहीं पीना सुबह भी नहीं रात को भी नहीं और दाल रोटी सब्जी जो मिलेगा खाएंगे दूध नहीं पीना और अपना परीक्षण करना है कि क्या बिना दूध के जी सकते हैं या नहीं कष्ट तो नहीं होता एक बार मिठाई का नियम लिया दो महीने तक मिठाई नहीं खानी चीनी और चीनी से बनी कोई चीज नहीं खाएंगे दो महीने तक का संकल्प लिया बहुत अच्छा चला हमें तो बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि वाह हम मन को जीत सकते हैं हम इंद्रियों को जीत सकते हैं हम बिना स्वाद लिए खा सकते हैं खूब आसानी से जी सकते हैं बहुत कॉन्फिडेंस आया इतना उत्साह बढ़ा हमने एक महीना और बढ़ा दिया दो महीने का था तीन महीना कर दिया अभी एक महीना और नहीं खाएंगे वो भी अच्छी तरह निकला फिर और उत्साह बढ़ गया तो हम बढ़ाते गए बढ़ाते गए आठ महीने तक इसका पालन किया चीनी और चीनी से बनी कोई चीज नहीं खाई फिर शरीर की मिठास पूर्ति के लिए कहीं थोड़ा थोड़ा गुड़ कभी कभी खा लेते थे ताकि उसका पोषण ठीक बनता रहे शरीर का पर चीनी का संकल्प था चीनी नहीं खानी और चीनी से बनी कोई मिठाई नहीं खानी खीर हलवा कुछ भी नहीं किसी भी परिवार में जाते थे वो खीर हलवा बनाते थे हम खाते नहीं तो खिलाने वाले तंग आ गए गुरु जी बहुत हो गया नियम अब शुरू करो <laughs> बहुत होगी तपस्या बंद करो इसको हमारी इच्छा है खीर खिलाने की हम खाते नहीं तो हम कहते हैं खिलानी है तो गुड़ वाली खिलाओ अब गुड़ वाली वो ढंग की बनेगी उनसे तो बोले हमसे नहीं बनती हम तो चीनी वाली बनाएंगे तो हमने कहा चलो ठीक है अब शुरू करते हैं आठ महीना हो गया बहुत हो गया तो ये एक उपाय था कि कभी कभी उस चीज को बंद कर दिया जाए और फिर देखो अपना परीक्षण करके कि उसके बिना जी सकते हैं या नहीं ऐसे कितने ही वर्षों तक ये प्रयोग किए और कर करके फिर अच्छी तरह समझ में आई कि हाँ हाँ और आराम से जी सकते हैं तो तब के बाद बहुत सुखी हो गए और आज तीस बत्तीस साल हो गए हमने नियम बना रखा है फरमाइश नहीं करने और कभी नहीं की अच्छे अच्छे परिवारों में जाते हैं लोग पूछते हैं गुरु जी आपकी फेवरेट आइटम बताइए जो आपकी फेवरेट आइटम हो वो बनाएंगे जो आपको पसंद हो वो बताइए तो हमने कभी नहीं बताई हम कहते हैं दाल रोटी खाएंगे साथ ही जो आप खाते हैं वो हम खाएंगे कोई फेवरेट आइटम नहीं है बस सादा भोजन शरीर के लिए वही अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो पोषक हो रोग नाशक हो बस ओम अन्न पते अन्न से इस मंत्र में यही तो कहा है पुष्टिकारक हो रोग नाशक हो बुद्धिवर्धक हो स्वास्थ्यवर्धक हो ऐसा भोजन खाओ फालतू चटपटी चीजें खा खा के तो और रोगी होता है आदमी हाँ जी बोलिए उनका भी सब पर ये तो एक उदाहरण है खाने पीने का ऐसे ही घूमने फिरने का देखने का सुनने का जंगल में रहने का सिटी में नहीं जाने का कहीं घूमना नहीं कहीं देखना नहीं अपना काम करो वैरागी को बढ़ाओ तत्व ज्ञान का चिंतन करो सभी इंद्रियों पर कंट्रोल करो सुनना भी है तो बस काम चलाने के लिए सुनना सुख लेने के लिए नहीं कई लोगों को बात करने में गप्पे मारने में बहुत मजा आता घंटों तक टेलीफोन पे बातें करते रहते और कुछ और काम नहीं होता तो फिर यही पूछते रहे हाँ खाना खाया कि नहीं खाया अरे ये भी कोई पूछने की बात है टेलीफोन पे पूछ रहे खाना खाया कि नहीं खाया और कई लोग तो रसोई की बात शुरू कर देते अच्छा आज क्या बनाया अच्छा आज फलानी आइटम बनाई अच्छा कैसे बनाई मुझे रेसिपी बताओ मैं भी सीख लू अरे टेलीफोन इस काम के लिए रेसिपी सीखने के लिए तो वो गप्पे मारने में मजा आता है वो नहीं लेना किसी भी काम में मजा नहीं लेना किसी भी इंद्रिय के प्रयोग करते समय उसका सुख नहीं लेना सुख लिया तो चार दुख नहीं छोड़ेंगे वो चार दुख फिर घेर लेंगे परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोध दुख सामान्य व्यक्ति को इन भोगों में ये दुख दिखते नहीं बस इसी का नाम अविद्या और वो उसको दुख दिखते नहीं और वो केवल सुख दिखता है और वो सुख लेता रहता है और फंसता रहता है उसको राग होता रहता है फिर जब वो सुख नहीं मिलता तो फिर उसको गुस्सा आता है वो राग उसको परेशान करता है कोई छीन के ले जाए तो द्वेष हो जाता है कोई छीन ले जाए तोड़ फोड़ डाले तो उस पर क्रोध आता है बहुत गुस्सा आता है फिर वो दुखी होता है तो इसलिए सुख लेना ही नहीं बस जीने के लिए खाओ जी जी हाँ तो तो हाँ तो जी दो दिन पांच दिन सात दिन घर से बाहर रहो परीक्षण करो कि मैं घर की सुविधाओं के बिना बाहर जितनी कम सुविधाएं मिलती है क्या इतनी सुविधाओं में जी सकता हूँ आराम से जी सकता हूँ परेशानी तो नहीं होती कष्ट तो नहीं होता ऐसे घर छोड़ छोड़ के दो दिन चार दिन पांच दिन सात दिन उसको अपना परीक्षण करना चाहिए क्योंकि मोक्ष का जो पूरा रास्ता है उसके लिए घर तो छोड़ना ही पड़ेगा परिवार छोड़ना ही पड़ेगा संन्यास लेना ही पड़ेगा उसके बिना मोक्ष नहीं होने वाला आप कहते साहब बड़ा कठिन है हमारे बस का कोई बात नहीं बैठे रहो घर आपका राग नहीं छूटेगा परिवार वालों से राग नहीं छूटेगा राग बना रहेगा वैराग्य नहीं होगा मोक्ष होगा नहीं फिर कहेंगे साहब इस जन्म में तो मुश्किल है कोई बात नहीं अगले जन्म में सही छोड़ना तो पड़ेगा चाहे अगले जन्म में छोड़ो या दस जन्म बाद छोड़ो छोड़ना तो पड़ेगा उसके बिना मोक्ष नहीं होने वाला घर छोड़ना पड़ेगा परिवार छोड़ना पड़ेगा संपत्ति छोड़नी पड़ेगी अगर घर बैठे बैठे मोक्ष हो जाता है तो महर्षि दयानंद घर क्यों छोड़ते महात्मा बुद्ध घर क्यों छोड़ते महावीर स्वामी घर क्यों छोड़ते ये जितने संत महात्मा हुए अपने घर छोड़ के क्यों भागे स्वामी शंकराचार्य क्यों घर छोड़ते तो शास्त्र का सिद्धांत है कि राग को छोड़ना पड़ेगा द्वेष को छोड़ना पड़ेगा और घर परिवार में रह करके राग छूटना बड़ा कठिन है कठिन क्या असंभव कबीर हम्म। कबीर हाँ ये ये जो भी लोग थे जितना भी इनका घर से संपर्क था उतना उतना इनको राग था अब जितना जितना घर से दूर थे उतना उतना इनको राग कम था राग तो साथ में रहने पर रहता ही है खासतौर से जो परिवार वाले जिनके साथ हम बचपन से पैदा हुए रहे जिनके साथ माता पिता के साथ उनके साथ तो राग होना स्वाभाविक है क्योंकि उनसे सुख लिया सुखानुषयी राग अब जिससे सुख लोगे राग होगा अब घर वालों से तो बहुत सुख लिया बचपन से जन्म से लेकर अब तक तो राग तो हो गई ना उस सारे राग को छोड़ना पड़ेगा उस सारे राग से छूटना पड़ेगा तब मोक्ष होगा उसके बिना नहीं होगा अब घर में रह के मोक्ष हो जाता तो हम भी अपने घर में रह लेते हम क्यों छोड़कर भागे हम भी छोड़ आए घर हमारे घर में कोई समस्या थोड़ी थी दुनिया वालों से बहुत अच्छा घर है हमारा बहुत अच्छे अच्छे नियम हमारे घर में होते हैं पालन अस्सी नब्बे साल से चल रहे हैं दुनिया वालों से तो बहुत सुखी थे हम अपने घर में ही बहुत सुखी थे पर हमने देखा हमको जाना मोक्ष में ये घर दुनिया से लाखों गुना लाखों घरों से अच्छा है लाखों में एक घर है हमारा तो भी ये मोक्ष में बाधक है मोक्ष के हिसाब से तो इसको भी छोड़ना पड़ेगा इसलिए छोड़ दिया और छोड़ने के बाद आज मुझे घर छोड़े इकतीस वर्ष हो गए इकतीस साल हो घर छोड़ने के बाद मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैंने घर छोड़ के गलती की और ये तो हुआ कि मेरी तो लॉटरी लगी मैंने घर छोड़ा मेरी तो लॉटरी लगी बहुत अच्छा वो घर छूट गया मेरी बहुत अच्छी प्रगति हुई घर छोड़ने के बाद घर छोड़कर घर में रह करके नहीं हो सकती जब मन में सारा वैराग्य भाव आ गया जी अब घर में है या ना है हम्म। इसका उत्तर यह है कि जो वैराग्य भाव आया आपके घर में रहते हुए अगर आप आगे भी घर में रहेंगे जितना आया है ना उतना वापस चला जाएगा सब गायब हो जाएगा ये टिकेगा नहीं वो तो वैराग्य सच्चा आया ही नहीं इसीलिए हम कहते हैं घर में सच्चा आता ही नहीं वो थोड़ा थोड़ा ही आता है उसी को बढ़ाने के लिए घर छोड़ना पड़ता है घर छोड़ दिया और पूरा वैराग्य का पूरा मैंने साधना किया जी अब मेरे को समझ में आ गया जी अब मैं मुझे घर में भी छोड़ दो या रास्ते में भी छोड़ दो अब घर में क्यों जाना चाहते हैं अब क्यों जाना चाहते हैं अगर मैं हूँ घर में तो भी मेरे को कुछ भाव नहीं मेरा एक प्रश्न है अब वापस घर में क्यों जाना चाहते हैं उसका कारण बताइए अब उसका मुझे राग नहीं रहता राग नहीं तो जाने का मतलब ही नहीं यही तो सिद्ध कर रहा है नहीं यही तो आपका राग सिद्ध कर रहा है कि आप वापस घर जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं विरोध भी नहीं नहीं नहीं नहीं आप इस बात पर कंसेंट्रेट कीजिए आप वापस घर क्यों जाना चाहते हैं जब आपको वैराग्य तो हो ही गया घर से वैराग्य तो हो ही गया परिवार के सदस्यों से भी हो गया संपत्ति से भी वैराग्य हो गया अभी अभी क्या है वैराग्य आपको पकड़ में नहीं आया वैराग्य है क्या जब वैराग्य की परिभाषा समझ में आएगी ना तो आपका समाधान हो जाएगा वैराग्य का मतलब क्या होता है उसमें आसक्ति का न रहना राग आसक्ति अटैचमेंट वैराग्य राग नहीं आसक्ति नहीं अटैचमेंट नहीं सब दुनिया एक जैसी जैसे आपके घर के लोग हैं ऐसे ही सारी दुनिया के ये भी मनुष्य है ये भी मनुष्य है ये भी मनुष्य है घर वाले भी मनुष्य है आप अपने ही घर में क्यों जाना चाहते हैं इनके घर में क्यों नहीं जाते उनके घर में क्यों नहीं जाते सारी दुनिया की जैसी है कहीं भी जाओ कहीं भी रहो कहीं भी खाओ किसी के साथ भी बैठो किसी के साथ भी बात करो उसी घर का आग्रह क्यों ये इस बात को सिद्ध करता है अभी उसमें अटैचमेंट है आपकी इसलिए वापस जा रहे हो महर्षि दयानंद ने अपना घर छोड़ दिया कभी वापस नहीं गए फिर लौट के घर नहीं गए मैं भी नहीं जाता मुझे इकतीस साल हो गए घर छोड़ दिया मैं घर नहीं जाता हाँ मेरे घर के लोग मुझे मिलने आ जाए तो अलग बात है उनको तो मैं धक्का नहीं मार सकता <laughs> उनकी इच्छा होती है मिलने की वो आ जाते हैं मेरी इच्छा नहीं होती घर जाने की मैं घर वालों से मिलू कोई उनसे रिश्तेदारी रखू कोई हालचाल पूछूं भाई तुम्हारे मेरे भाई भतीजे कैसे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं रहे हैं महाराज क्या हो रहा है पढ़ाई ठीक चल रही है कोई अकाउंट तो नहीं टूट गया एक्सीडेंट तो नहीं हुआ <laughs> मैं कभी नहीं पूछता न मेरी इच्छा होती घर जाने की जैसे आप हैं ऐसे मेरे घर के लोग हैं ऐसे सारे लोग कभी कभी वो मेरा प्रवचन सुनने आ जाते हैं मेरे घर के लोग जैसे आप सुन रहे हैं वो भी आ जाते हैं आप सुनते हैं वो भी सुन लेते आप प्रश्न पूछते हैं वो भी पूछ लेते हैं आपको उत्तर देता हूं उनको भी दे देता हूं बस फिर नमस्ते अब अपने घर हम अपने घर <laughs> इसका नाम है वैराग्य गुरु जी आग्रह तो करते हो अब नहीं करते मेरे घर वाले बहुत समझदार है मैंने पहले बताया था आपको लाखों में एक आध घर है हमारा हमारे घर के सब बुद्धिमान लोग पढ़े लिखे हैं और वैदिक परंपरा के हैं वो मुझे कहते भी नहीं कि तुम घर चलो उनको पता है घर आएगा नहीं फिर बोल के क्यों अपना मुंह क्यों खराब करे <laughs> उनको पता है आएगा नहीं इसलिए कोई कहता भी नहीं ठीक है जी हाँ बोलिए तो ये जो सुखानुषयी राग है सुख लेने की पश्चात हम्म। तो राग की जो स्टेज चल रही है हम्म, हम्म। ये उदार अवस्था में जी उसी को बताए या फिर विच्छिन्न भी हो सकती है ना वो किसी भी अवस्था में हो ये तो राग एक डेफिनेशन बताई राग क्या चीज है अवस्थाएं तो उसकी अलग अलग है जिस चीज का आपने सुख ले लिया उसका राग बन जाएगा सुख नहीं लिया तो राग नहीं बनेगा आप स्टेशन पर जाइए प्लेटफॉर्म पर वहां आपको 500 आदमी मिलेंगे अगर आपने उन 500 में से किसी एक आदमी को सुख ले लेकर के देख लिया बड़ा सुंदर है बहुत अच्छा लग रहा है आप बार बार उसको देखते हैं और उसका सुख ले रहे हैं तो घर जाके आपको वो याद आएगा और चार सौ निन्यानवे आदमी आपको याद नहीं आएंगे और उनमें से कोई चार सौ निन्यानवे में से कोई सामने आ गया तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे पूछो भाई ये आदमी स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे आपने देखा था तो साहब मुझे मालूम नहीं मुझे याद नहीं आता क्योंकि आपने ध्यान से उसको देखा ही नहीं जब ध्यान से नहीं देखा तो उसका संस्कार नहीं बना जब संस्कार नहीं बना तो स्मृति नहीं बनेगी पर जिसको आपने खास ध्यान से देखा बार बार देखा सुख ले लेकर देखा उसका संस्कार बनेगा उसकी स्मृति बनेगी और अगर सुख लेकर देखा तो उसका राग भी हो जाएगा और आप दोबारा उस व्यक्ति से मिलना चाहेंगे उससे फिर कोई कॉन्टेक्ट नंबर भी ले लेंगे शायद संभव हो तो कई बार होता है ऐसा तो कॉन्टेक्ट नंबर भी ले लेता है या ट्रेन में कई लोगों से दोस्ती हो जाती है तो अच्छा लगता है उनसे सुख मिलता है तो वो लोग संपर्क भी ले लेते हैं एक दूसरे का इस तरह से तो किसी भी चीज का सुख लेंगे तो राग होगा अब ये राग की स्तर अलग अलग रहेंगे कभी वो तनु होगा कभी विच्छिन्न होगा कभी उदार होगा कभी कमजोर होगा कभी बलवान होगा वो स्तर अलग अलग हो सकते हैं जितना अधिक अधिक सुख लेते जाएंगे किसी भी चीज का उतना उतना राग बलवान होता जाएगा जैसे कई लोग चाय का सुख लेते हैं रोज दिन में दो बार तीन बार उनको भयंकर राग हो जाता है वो चाय नहीं छोड़ सकते चाय नहीं छोड़ सकते एक टाइम भी नहीं मिले तो सब दुखने लगेगा चाय नहीं छोड़ते हो तो सुख ले लेकर के आदत हो गई इसी आदत का नाम ही तो राग यही तो संस्कार है इसका नाम है राग अब वो छोड़ती नहीं तो जो सुख लेने के बाद राग हुआ हम्म। और पहले संस्कारों के कारण पहले भी राग हम्म। तो उस राग में और इस राग में कोई अंतर नहीं बीस बार सुख ले चुके हम खीर का तो उसके बीस संस्कार बन चुके आज इक्कीसवीं बार फिर खाया सुख खीर फिर उसका सुख लिया तो उसमें एक यूनिट और जोड़ गया अब इक्कीस यूनिट हो गए राग के हाँ उसकी ताकत बढ़ती जाएगी फिर पांच बार और सुख लिया पांच यूनिट और जुड़ जाएगा और बलवान होता जाएगा और उतनी ताकत से हमला करेगा सत्ताईसवीं बार फिर कहेगा लाओ खीर छब्बीस बार सुख ले चुके सत्ताईसवें बार फिर लाओ और उस दिन नहीं मिला सुख खीर खाने का सुख नहीं मिला तो उस दिन फिर बड़ा कष्ट होगा ये सब आगे संस्कार दुख में आने वाला है संस्कार दुख में आएगा तो ये जो पांच अवस्थाएं बताई तो एक छठी भी अवस्था है पर गौन है बहुत कौन सी जब मोक्ष से वो लौटा हम्म। अभी तक तो उसने पदार्थ खाया नहीं हम्म। तो उस समय तो उसको राग नहीं अभी कोई राग नहीं तक बीज भी है ही नहीं प्रसुप्त नहीं विच्छिन्न नहीं उदार नहीं अभी है ही नहीं है ही नहीं हाँ, है ही नहीं वो तो जब आएगा तो उसके संपर्क में आएगा तब नया पैदा होगा ये पांच प्लेट तो इसने मार दिए जब मार दिए तो इसी कंडीशन में तो मोक्ष हुआ जब वो मोक्ष में चला गया तो ये पांच क्लेश में से कोई भी नहीं अच्छा। अविद्या अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश कुछ भी नहीं है बिल्कुल फ्रेश होकर के गया आज एक व्यक्ति ने अशोक आर्य ने शंका पूछी फेसबुक पे अच्छा। हाँ उसने लिखा कि जब संस्कारों को दबबीज कर देंगे फिर कर्म का फल कैसे मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा क्या इस बारे में कुछ व्याख्या करें ऐसा उसने प्रश्न पूछा तो मैंने उसको उत्तर लिखा कि संस्कार अलग चीज है और कर्म अलग चीज है समाधि से आप संस्कारों को दग्धबीज कर सकते हैं कर्मों को नहीं संस्कार नष्ट कर दिए तो मोक्ष हो जाएगा और जो कर्म आपने कर रखे हैं वो तो फल देंगे संस्कार के दग्धबीज होने से कर्म पे कोई असर नहीं होता वो तो फल देगा ही देगा चाहे मुक्ति से लौट कर वो देगा वो वो तो भोगने से ही नष्ट होता कर्म उसका और कोई चारा नहीं कोई दूसरा ऑप्शन नहीं यहाँ कर्म का अर्थ यानी जो वैश्विक न्याय का है वो तो जो भी क्रिया किया आपने जैसे जैसे कोई दान दिया ये कर्म हो गया चोरी की ये कर्म हो गया अब एक व्यक्ति ने चोरी की दो हजार रूपये चार हजार रूपये पांच हजार रूपये चुरा लिया तो चोरी करना ये कर्म है और इसका मन पे प्रभाव पड़ा कि चोरी करने से फायदा होता है पांच हजार मिल गया ये फायदा होता है ये जो मन पे पड़ा प्रभाव इसका नाम है संस्कार तो क्रिया की वो अलग चीज है और मन पे जो प्रभाव पड़ा वो अलग चीज है आप समाधि लगाएंगे तो ये जो संस्कार था मन पे पड़ा था कि चोरी से फायदा होता है ये तो संस्कार नष्ट हो जाएगा समाधि लगाने से आप चोरी नहीं करेंगे उस चोरी करने की जो इंटेंशन है वो खत्म हो जाएगी लेकिन जो चोरी कर चुके वो था कर्म वो इससे नहीं हटने वाला उसका तो दंड भोगना ही होगा चाहे मुक्ति से लौट कर भोगो मुक्ति हो जाएगी आपकी क्योंकि सारे पांच क्लेश नष्ट हो चुके हैं संस्कार नष्ट हो चुके हैं मोक्ष तो हो जाएगा पर वो कर्म अब वो खाते में पड़ा हुआ है वो छोड़ेगा नहीं वो तो लौट के भी फिर भोगना ही पड़ेगा इसलिए संस्कार तक भी करने से कर्म पे कोई असर नहीं होगा ऐसा मैंने उनको लिखा जवाब तो यहाँ पे कर्म और धर्मा धर्माधर्म जो बोलते हैं लोग हाँ जी हाँ जी हाँ जी अब वो कर्म और धर्मा धर्म एक ही बात है कर्म के तीन स्थितियां हैं एक है क्रियमान एक संचित एक प्रारंभ इन तीन में जो संचित है ना उसी का नाम धर्म जो स्टॉक में हमारे जमा है डिपॉजिटेड संचित उसी का नाम धर्म वो कर्म ही है जो क्रिया कर रहे हैं चालू ये है क्रियमान क्रिया कंप्लीट हो गई जमा हो गई ये संचित हो गया उस स्टॉक में से कुछ का फल मिलना शुरू हो उसका नाम प्रारब्ध तो ये तीनों कर्म ही है तो जो बीच वाला है ना संचित उसी का नाम धर्माधर्म उसी का फिर हमको आगे फल मिलता जातीय विभोग ठीक है तो ये हो गया सुख सुखानुषयी राग सुख लेंगे तो राग बनेगा निश्चित रूप से बनेगा और ये फिर हमको परेशान करेगा ये क्लेश है जब वो सुख नहीं मिलेगा तब हमको दुख देगा भाष्य पढ़ते हैं सुखाभिज्ञस्य सुखाभिज्ञस्य सुखानुस्मृतिपूर्वः सुखानुस्मृतिपूर्वः सुखे सुखे तत्साधने वा तत्साधने वा योगर्धः योगर्धः तृष्ण तृष्णा लोभ लोभः सराग सराग इति सुख अभिज्ञस्य सुख के ज्ञाता का सुख भोगने वाले का जिसने सुख भोगा खीर का उदाहरण ले लेते हैं जिसने खीर खा के सुख लिया उस आत्मा का सुखानुस्मृति पूर्वक वो खीर के सुख की स्मृति करेगा पहले कि एक हफ्ता पहले खीर खाई थी बहुत अच्छी थी ऐसी तो रबड़ी वाली खीर कभी कभार मिलती उसमें बढ़िया पिस्ता केसर और इलायची और बहुत बढ़िया सुगंध वाली ऐसी खूब घोट रखी थी डेढ़ दो घंटे तक मलाई रबड़ी जैसी बना रखी थी ऐसी खीर तो कभी कभी मिलती है खाने वो उसको याद करेगा आज एक सप्ताह के बाद याद करेगा कि वाह बहुत अच्छी खीर खाई थी इस तरह से स्मृति पूर्वक सुखे तत्साधने वा उस खीर के सुख में अथवा खीर में वो सुख का साधन था खीर तो उस सुख में अथवा उस सुख के साधन खीर में योग अर्थ जो इच्छा होती है जो दोबारा इच्छा होती है हाँ आज फिर वही खीर लाओ एक सप्ताह पहले जैसी खाई थी आज फिर कहीं से उसका प्रबंध किया जाए वैसा ही सुख आज फिर लेंगे इस तरह की जो इच्छा होती है गर्धा इसी के पर्याय शब्द आगे लिखे तृष्णा वो भी इच्छा ही लोभ ये भी इच्छा ही तो तृष्णा गर्धा लोभ इसका नाम है राग स राग इति इसको राग कहते तो वही सुख दोबारा चाहिए ऐसी इच्छा बार बार पैदा होती है इसका नाम है राग तो घर वालों के साथ रहे उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की खिलाया पिलाया पैसे भी दिए विद्या भी पढ़ाई सब प्रकार से सुरक्षा भी की बहुत सारा सुख मिला उनमें राग हो गया अब इस राग से छूटना बड़ा टेढ़ा काम बहुत कठिन इसलिए घर छोड़ना पड़ता है उनसे दूर रहना पड़ता है और जब दूर हो गए दूर रह रहे करके उस राग को हमने थोड़ा दबाया कमजोर किया नष्ट कर दिया ठीक है तो जब नष्ट ही कर दिया तो फिर वापस क्यों जाना वहां जाने का कोई मतलब नहीं और अगर फिर भी इच्छा होती है वापस जाने की तो इसका अर्थ है नष्ट नहीं हुआ अभी वो बचा हुआ है थोड़ा तनु हो गया थोड़ा कमजोर हो गया लेकिन ध्यान रखना अभी पिछली बात बताई थी ना जैसे ये प्रतिपक्ष भावना से कमजोर होते हैं ये रागद्वेश ऐसे ही आलम्बन के उपस्थित होने पर बढ़ते भी हैं आप दस साल घर से बाहर रहे तो घर वालों का राग कम हो गया दस साल में फिर एक साल वापस घर जाके घर वालों के साथ रहने लगे वो वापस राग बढ़ जाएगा <laughs> इसलिए खतरा है वहां से दूर रहो घर वालों से दूर रहो नहीं तो राग वापस जाग जाएगा फिर बलवान हो जाएगा फिर आपको वही समस्या आएगी प्रैक्टिकल करके देखो ये तो अभी थ्योरी कर रहे हैं हम प्रैक्टिकल करके देखो पता चल जाएगा बोलिए तो हमने घर छोड़ दिया संग से हो गया हम्म। तो जाप तो रहेगा तो इस हाँ। बात में है कि राग या द्वेष उन लोगों से नहीं होगा नहीं होगा स्मृति तो रहेगी स्मृति तो रहेगी हाँ हम भूल नहीं जाएंगे याद तो रहेगा ये हमारे पिताजी थे ये हमारी माता जी ये हमारे भाई याद तो सब है पर उसमें आसक्ति नहीं है अटैचमेंट नहीं है याद होना तो इन्फॉर्मेशन हो तो जानकारी हो तो हिस्ट्री है हिस्ट्री थोड़ी भूल जाएंगे वो हिस्ट्री याद रखना वो एक अलग बात है पर अटैचमेंट नहीं है इसका नाम वैराग्य हम्म कुछ पूछ रहे हैं खीर का हमने राग कम कर दिया जी बाद में फिर खीर आ गई जी तो फिर खाए ठीक है इच्छा इच्छा हुई कि नहीं खीर आनी चाहिए नहीं इच्छा नहीं हुई ना सारा प्रयत्न किया सारा बल से उसको हमने जैसे कि आठ महीने छह महीने छोड़ के उसके साथ में हमारा खत्म कर ठीक है बाद में अब खीर आई तो भी बस शरीर के लिए खाना हाँ ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं खा सकते फिर परीक्षण करना हाँ। उसके बाद फिर परीक्षण और करना है कि खीर आई और हमने खा ली कैसा लगा इच्छा हुई नहीं हुई मजा लिया नहीं लिया वो तो रोज परीक्षण करना है इसके लिए खीर खाना ही सामने खा लेंगे हाँ खा लेंगे खाने में दिक्कत नहीं है कार में बैठेंगे उसमें दिक्कत नहीं है ट्रेन में जाएंगे एसी कोच में जाएंगे फ्लाइट में उड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है वस्तु का प्रयोग करने की मनाही नहीं है उसका सुख लेने की मनाही है हाँ सुख नहीं लेना बस वस्तु तो साधन है ये सारी प्रकृति मोक्ष प्राप्ति का साधन है वेदों में शास्त्रों में ये लिखा है इसको साधन बना के यूज करो कोई आपत्ति नहीं है इसके बिना तो हम जियेंगे कैसे यात्रा कैसे करेंगे खाएंगे पियेंगे नहीं तो शरीर बलवान कैसे बनाएंगे कैसे बनेगा वो बनेगा नहीं तो सेवा कैसे करेंगे पढ़ाई कैसे करेंगे ध्यान कैसे करेंगे प्रचार कैसे करेंगे यात्रा कैसे करेंगे शक्ति तो चाहिए ना तो ये शरीर भी मन बुद्धि इंद्रिया ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और खीर पूरी हलवा ये भोगे पदार्थ है इनका मजा नहीं लेना इनको इनको बस जीवन रक्षा के लिए उपयोग करना है ये तो हो जाएगा मोक्ष का रास्ता अगर इनको जीवन रक्षा के लिए हम प्रयोग करते हैं इन पदार्थों को ऑब्जेक्ट्स को तो ये हमको मोक्ष तक पहुंचा देंगे और अगर इन्हीं को लक्ष्य बना लिया और ईश्वर छोड़ दिया और भोगों को ही लक्ष्य बना लिया इसी का सुख लेना तो ये बांध लेंगे यही फंस जाएंगे फिर अविद्या बढ़ेगी राग बढ़ेगा द्वेष बढ़ेगा और फिर अगला जन्म वो अगला जन्म चालू रहेगा मोक्ष नहीं हो पाएगा ठीक है जी बोलिए तो अभी जो हमारी जो अवस्था है संप्रजाता की नहीं संप्रजाता तो तनु तनु ही तक ही जाएगी बात हाँ अभी तो ये तनु तक जाएगी आप जोर लगाएंगे विरोध करेंगे सुख नहीं लेना है खीर का सुख नहीं लेना एसी का सुख नहीं लेना उपयोग करना है सुख नहीं लेना खीर खा लो मलाई खाओ मक्खन खाओ मैं पंजाब में जाता हूँ एक माता जी मुझे मलाई खिलाती है तो उनके घर मलाई खाने की परंपरा उनको अच्छी लगती है वो जब मैं जाता हूँ तो मुझे भी खिलाती है तो खिलाती है तो मैं खा लेता हूँ पर मांगता नहीं कभी भी किसी से <laughs> मांगता कभी नहीं हूँ वो खिलाते हैं उनके कोई मक्खन खिलाता है लुधियाना में एक मक्खन खिलाते हैं तो मक्खन खा लेता हूँ जालंधर में माता जी मलाई खिलाती है तो मलाई खा लेता हूँ मांगता कभी नहीं मन में कभी नहीं सोचता कि हाँ मलाई मिलनी चाहिए <laughs> कैसे नहीं फिर तो वही बात होगी ना राग वाली तो मन में इच्छा नहीं करनी मिल गया तो खा लिया नहीं मिला तो ठीक है जो मिला वो खा लिया इस तरह से प्रयोग करना तो साधन बनाकर प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं ये साधन है मन में इच्छा नहीं रखनी कि ये चीज मिलनी ही चाहिए इसका मुझे सुख लेना ये सोचा तो फिर खतरा है फिर फिर क्या होगा इस इस प्रतिपक्ष भावना से कि सुख नहीं लेना है ऐसा करने से वो तनु हो जाएगा कमजोर हो जाएगा तभी विवेक नहीं होगा वो तो समाधि से ही होगा उसके लिए समाधि तक पहुंचना पड़ेगा वो हाई स्टेज है ऊंची स्टेज है देर लगेगी बहुत समय लगेगा तपस्या करनी पड़ेगी लंबा टाइम लगेगा अभ्यास करना पड़ेगा ये सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा घर से दूर रहना पड़ेगा तब जाके मुश्किल से वो स्तर आएगा तो इससे तनु तक तो हो जाएगा और फिर जब और अलग से जाके जंगल में और आश्रमों में रह के अभ्यास करेंगे तो कई वर्षों तक अभ्यास करने पर वो प्रसुप्त होगा तंत्र बीज फिर भी नहीं होगा व्यास भाष्य में लिखा है ना तत्र एवं योगिनी वो योगी के अंदर ही वो दगबीज वाली अवस्था आती है प्रसंख्यान वो ऊंचे तत्व ज्ञान वाले को ही मिलती है वो संस्था अन्यत्र और किसी में नहीं उसके लिए तो समाधि अनिवार्य तभी तक बीज हो और फिर उसका मोक्ष हो ठीक है और कोई बात पूछनी है आगे का तो जो असंप्रजत वाला योगी है हाँ चरम देही हाँ बीच सब हो गए हाँ तो वो सिर्फ अविद्या पे ही प्रहार करता रहता है या वो बस अविद्या को ही मारता है वो तो बहुत ऊंची बात है हमको भी वही काम करना सबके लिए एक ही काम एक को मारो सारे मर जाएंगे क्योंकि ये सारे अविद्या के बढ़ने पर सारे बढ़ते हैं अविद्या के घटने पर सारे क्लेश घटते हैं तो असली शत्रु तो एक ही है ना अविद्या बस एक को ही मारो वो अपने आप ऑटोमेटिक नीचे आते जाएंगे अविद्या को जैसे जैसे मारेंगे राग द्वेष अपने आप घटता जाएगा उसको अलग से पीटने की आवश्यकता नहीं परीक्षा भी अविद्या से ही करेगा उसका बीज हाँ वो अविद्या से ही उसकी परीक्षा भी होती रहेगी परीक्षा तो रोज ही होती है तो एक दिन आपको पनीर नहीं मिला देखो फिर क्या हालत होती है <laughs> क्या हालत बनती है अगर गुस्सा आता है तो समझ लो अभी राग है क्यों नहीं मिला टाइम पर क्यों नहीं मिला ये सभी चीजें जब याद आती है तभी दुख होता है स्मृति पूर्वक हाँ, याद तो सारे दिन आती रहती आदमी ऑफिस का काम करता है बीच में गुलाब जामुन को याद करता है <laughs> याद तो आती रहती कभी कभी ऐसी बीमारी होती किसी याददाश्त मतलब खो जाती है हाँ, हाँ, नहीं, होती नहीं है हाँ, उसको बोलने की बीमारी लग जाती है अच्छा कल क्या किया उनको आज याद नहीं हाँ भुलक्कड़पन तो उनका भी संस्कार बनता रहता है या वो तो भूल जाते हैं तो? उनका भी क्या होता है अब नया संस्कार नहीं बनेगा भूलने की बीमारी लग गई क्या खाया था नहीं नहीं वो उसमें वो नुकसान भी है उसमें नुकसान भी है किसी को पैसे दे देगा फिर भूल जाएगा <laughs> तो नुकसान भी तो होगा ना उसको पैसे दिए थे भूल ही गए कोई भी चीज का माइनस और प्लस दोनों पॉइंट्स होते हैं दोनों पक्ष होते हैं अगर उसमें कुछ लाभ है तो कुछ आने भी जरूर है क्योंकि वो असामान्य स्थिति है वो तो रोग है वो तो, तो रोग है ना भुलक्कड़ बन बचपन वो रोग है वो अच्छा, तो अच्छा नहीं है हाँ वो हानिकारक है हमको उस संस्कार से बचने के लिए भुलक्कड़पन नहीं अपनाना हमको उस संस्कार से बचने के लिए जानबूझकर उसको भूलना है क्षमता होते हुए भी हमको उसको भूलना है उसको दोहराना नहीं है उसमें आसक्ति नहीं रखनी है ये काम करना न कि एक भुलक्कड़पन की बीमारी मोल ले ले तो चलो अब तो याद ही नहीं रहता तो वो संस्कार परेशान नहीं करेगा वो उपाय ठीक नहीं ये तो ऐसी बात है किसी को जुकाम होगा तो उसका नाक ही काट दो <laughs> ये नाक काटना उसका इलाज नहीं है ये बीमारी हो जाती है हाँ, किसी को हो गई तो फिर वो हो गई तो हो गई उसमें प्लस भी है और माइनस भी है कुछ लाभ है कुछ हानि भी है दोनों बात है पर एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए सामान्य नियम यही है कि भुलक्कड़पन से बचे और वो योजनाबद्ध जानबूझकर ज्ञानपूर्वक चीजों की स्मृतियों को हटाए राग को हटाए द्वेष को हटाए ये आदर्श अवस्था है ऐसी होनी चाहिए ठीक है जी तो जब वो योजना करेगा हम्म। ये चीज खानी है वो चीज खानी है हाँ सुख भी ना लिया हाँ। और जब योजना का काल हो तभी उसने ये किया और जब काम कर रहा है तो नहीं कर हाँ ठीक है तो वो ठीक स्थिति वैसे तो अच्छा है कि उसको ये भी नहीं सोचना पड़े कि आज क्या खाना है वो इससे भी बचे तो अच्छा है वो तो जाके थाली पर बैठ जाए हाँ जी लाओ क्या है जो है दे दो बस उसको तो पेट्रोल समझ के खाना पेट्रोल समझ के डालो तो इतना भी क्यों सोचे कि आज नाश्ते में क्या खाएंगे और लंच में क्या खाएंगे कुछ नहीं सोचना वो सोचने वालों का डिपार्टमेंट अलग है वो अपना सोचते रहे आज क्या बनाना वो हफ्ते भर की प्लानिंग कर ले तो, घर तो छोड़ दिया हाँ अब क्या बनाना है खुद को अच्छा मान लो अकेले ही है हम अकेले रह रहे हैं अब हमको ही डिसाइड करना कि नाश्ते में क्या खाना और लंच में क्या खाना तो ठीक है तब हमको सोचना पड़ेगा ऐसी परिस्थिति में हमको ही डिसाइड करना होगा तो हम क्या करेंगे नाश्ते में हल्का भोजन जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है रात का भी हल्का भोजन जो आराम से बच जाए सोते समय ज्यादा दिक्कत नहीं पैदा करे लंच में थोड़ा भारी सा जो शक्ति पुष्टि भी दे और शरीर को पच भी जाए ठीक तरह से फिर उस आधार पे हम डिसाइड करेंगे सुख लेने के लिए नहीं सुख लेने के लिए नहीं भले ही हम डिसाइड करेंगे पर फिर हम उस ढंग से सोचेंगे स्वास्थ्य के लिए क्या उचित है हाँ उसको ध्यान में रख के सारा नियम बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं हम घरों घरों में खाते हैं तो घर में लोग पूछते हैं गुरु जी क्या खाएंगे हम कहते हैं सादी दाल रोटी जो आप खाएंगे वो हम खाएंगे तो हम तो छूट गए ना इस चक्कर से कि क्या बनाना और क्या खाना और क्या नहीं कुछ नहीं हम तो छूट गए पर मान लो कभी ऐसी जगह फंस गए यात्रा में टिफिन लेके चले थे वो खत्म हो गया और ट्रेन हो गई लेट और अब वो ट्रेन में जो आता है बेचने वाला उसी से कुछ खाना पड़ जाए मान लो तब तो हमको इसे डिसाइड करना पड़ेगा अब क्या खाएं इसके बाद छह आइटम तो फिर हमको वही नियम अपनाना पड़ेगा कि इस समय भूख कितनी है यहाँ वस्तुएं कौन सी हैं इनमें से सबसे अच्छी चीज कौन सी है जो स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है और अगला समय भोजन कब मिलेगा कितनी देर के बाद मिलेगा गैप कितना है कितने गैप तक के लिए पेट की शांति के लिए कौन सी वस्तु अनुकूल पड़ेगी <laughs> इस आधार पे हम सेलेक्ट करेंगे बहुत कठिन है हाँ, हाँ।, हाँ। चीजें भी आ रही है हाँ। नमकीन भी आ रही है तो सबसे पार जाके उसमें से सेलेक्ट करना बड़ा टेढ़ा काम है और राग भी नहीं होना चाहिए बिना सुख लिए बिना सुख लिए खाना शरीर के उसके लिए खाना बहुत कठिन है सुंदर भी है हाँ सुंदर भी है हाँ तो ये गुरु जी ने हमको सिखाया आज मुझे पैंतीस वर्ष हो गए चौतीस पैंतीस वर्ष हो गए मैं रोज अपना परीक्षण करता हूँ सुबह क्या खाया दोपहर में क्या खाया रात को क्या खाया कितना खाया पचा के नहीं पचा अनुकूल पड़ा के प्रतिकूल पड़ा अब अगले समय में इसमें क्या परिवर्तन किया जाए पैंतीस साल हो गए रोज परीक्षण करता हूं तब जाके ठीक ठाक जी रहा हूं मुझे इतनी ट्रेवलिंग होती है भागना पड़ता है यात्राओं में एक साल में तीस हजार कभी कभी पैंतीस हजार किलोमीटर घूमता हूं एक साल में इतनी यात्राएं होती और इतनी यात्राएं करना स्वास्थ्य को ठीक रखना हर जगह का पानी अलग खाना अलग टेम्परेचर अलग जलवायु अलग धूल अलग मिट्टी अलग सब चीजें अलग अलग भोजन अलग कहीं पंजाब में जा रहे हैं वहां पंजाबी खाना मिल रहा है यहाँ महाराष्ट्र में आ रहे हैं तो मराठी खाना पड़ रहा है अगले दिन मराठी खाना अगले दिन फिर दिल्ली गए तो वहां कोई और खाना राजस्थान में गए तो कोई और खाना तो बहुत जल्दी जल्दी खाना बदलता है पानी बदलता है हवा बदलती है टेम्परेचर बदलता है इतनी सारी परिस्थितियों में भी हेल्थ को ठीक रखना तो बहुत सोचना पड़ता है क्या खाएं कब खाएं कितना खाएं कैसे खाएं कैसा खाएं बहुत सोचना पड़ता है और फिर भी फरमाइश नहीं करते बिना राग किए आग्रह पूर्वक शरीर के स्वास्थ्य को ध्यान रखना बस ऐसे ऐसे करना पड़ता है तब जाकर के स्वास्थ्य की भी सुरक्षा रहती है ठीक रहता है और वो योगाभ्यास भी ठीक रहता है राग द्वेष भी नहीं होता तो अब जैसे मैंने बताया कि धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है तो शरीर में अंतर आता है यात्राओं के कारण भी अंतर आता है तो अब कभी कभी बोलना पड़ता है भाई जरा हल्का भोजन बनाना पहले तो नहीं बोलता था मैं अभी दो तीन साल से मैं बोलने लगा हूं क्योंकि अब यात्रा में परेशानी होती है और उम्र भी बढ़ रही है पाचन शक्ति घटती है तो पहले तो मैं कुछ नहीं बोलता था बस जो मिलेगा खा लेंगे जो मर्जी बनाओ पहले ऐसा था अब दो तीन साल से मुझे कहीं कहीं बोलना पड़ता है भैया रात को खिचड़ी बनाना हाँ अब नाम बोलना बोलना पड़ता है खिचड़ी बनाना या दाल सब्जी खाऊंगा बस रोटी वोटी बंद अब रात की रोटी बंद कर दी मैंने नहीं अनुकूल पड़ती तो मत खाओ इस तरह से अब दो तीन साल से बोलने लगा नहीं तो पहले नहीं बोलता था जो मिलेगा सो खा लेंगे इस तरह से योगाभ्यास करना चाहिए ऐसे करने से सफलता मिलती है आप बिना राग के खा लेंगे बिना द्वेष के जी लेंगे किसी ने आपसे अच्छा व्यवहार किया तो ठीक है और गड़बड़ किया तो भी आप दुखी नहीं होंगे और अपना चुपचाप निपटा लेंगे द्वेष नहीं करेंगे एक सूत्र और पढ़ लें छोटा सा ये इससे तालमेल वाला इसलिए जैसे सुखानुषयी राग ऐसे ही अगला सूत्र बोलिए दुखानुषयी दुखानुषयी द्वेश द्वेश ये उससे उल्टा है दुख भोगने के पश्चात जो संस्कार पड़ता है मन पर उसका नाम द्वेष है जेलसी जलन क्रोध गुस्सा बदला लेने की भावना ये सारा द्वेष है भाष्य भी पढ़ लेते हैं दुखाभिज्ञस्य दुखाभिज्ञस्य दुखानुस्मृति पूर्व दुखानुस्मृति पूर्व दुखे दुखे तत्साधने वा तत्साधने वा यह प्रतिघो यह प्रतिघो मन्युर मन्युर जिघांसा जिघांसा क्रोध क्रोध सद्वेश सद्वेषः इति इति बिल्कुल वैसा ही वाक्य दुख भोगने वाले व्यक्ति का दुख को याद कर करके कि फलाने आदमी ने मुझे दुख दिया था उसने मेरे पैसे छीन लिए आज तक लौटाए नहीं वायदे ही करता रहता हाँ साहब दूंगा दूंगा देता है नहीं उसको याद कर करके उस दुख में जो धन छीन लिया उस दुख में अथवा उसके साधन में उस व्यक्ति में जिसने छीन लिया या किसी ने बदनाम किया उससे आपको दुख हुआ तो झूठारोप लगाने वाले व्यक्ति पर अथवा उससे जो दुख हुआ उस व्यक्ति में उस दुख में या दुख के साधन में यह प्रतीक हो जो उसका प्रतिकार करने की इच्छा पैदा होती है हम्म? बदला लेने की इच्छा पैदा होती है इसको छोड़ूंगा नहीं देख लूंगा मेरा भी मौका आने तो बताऊंगा इसको कैसे कैसे बदनाम किया जाता है इसको दिन में तारा दिखा दूंगा <laughs> ऐसे ऐसे व्यक्ति सोचता है तो ये प्रतिभो मन्यु तो सब पर्यायवाची मन्यु का अर्थ यहाँ वो वैदिक वाला नहीं लेंगे हाँ यहाँ तो झगड़े वाला झगड़े वाला गुस्सा जिघांसा उसको मारने की इच्छा उसका विनाश करने की इच्छा इसी को आगे क्रोध लिखा तो ये सब जो होता है इसका नाम द्वेष है ये द्वेष तो जब द्वेष होता है तो स्थिति बहुत बिगड़ती है जलन होती है दिमाग गर्म हो जाता है कुछ अच्छा नहीं लगता है मूड खराब हो जाता है अशांति पैदा होती है ये राग से ज्यादा खतरनाक है राग भी खतरनाक है वो भी दुख देता है द्वेष भी दुख देता है पर ये कंपेरेटिवली राग से ज्यादा दुखदायक ज्यादा परेशानी करता है आप किसी व्यक्ति से छह घंटे आठ घंटे राग कर लो आपको उतना कष्ट नहीं होगा और किसी व्यक्ति से एक घंटा द्वेष कर लो लगातार देखना खोपड़ी गर्म हो जाएगी <laughs> सर गर्म हो जाएगा परेशानी हो जाएगी आपको बेचैनी हो जाएगी कुछ अच्छा नहीं लगेगा इसलिए द्वेष तो और भी ज्यादा खराब इससे भी बचना चाहिए पर यह होगा तभी जब अविद्या है अविद्या है तो राग भी होगा अविद्या है तो द्वेष भी होगा अविद्या है तो अस्मिता भी होगा सारे क्लेश होंगे अब ये राग क्यों हो रहा है अविद्या से अविद्या के कारण राग इसलिए हो रहा है हमने मान रखा है कि इसमें बहुत सुख है जबकि है ये अविद्या बहुत सुख उसमें है नहीं इस अविद्या के कारण हमको उसमें राग हो गया हम चाहते हैं बहुत सुख बहुत सुख चाहते हैं लगातार चाहते हैं और किसी भी वस्तु में बहुत सुख नहीं मिलने वाला लगातार नहीं मिलने वाला अविद्या के कारण हमने उसमें ऐसा मान लिया इसलिए राग हो गया अटैचमेंट हो गई द्वेष हो गया जैसे एक व्यक्ति ने हमारी बदनामी की झूठा आरोप लगाया ऑफिस में और बॉस को बोला देखो साहब ये काम नहीं करते काम चोरी करते हैं और लोगों को ये दिखाते हैं हम बहुत अच्छे आदमी और ठीक काम करते हैं ये धोखेबाज है ऐसे ऐसे बदनाम किया तो आपने क्या सोचा कि ये बेकार आदमी इसने मेरा बड़ा नुकसान किया मेरी गुडविल खराब कर दी चार आदमियों में मुझे बदनाम कर दिया लोग मुझे अच्छी नजर से नहीं देखते ऐसे काम चोर की नजर से देखते घटिया आदमी देखते तो ऐसा जब आपने सोचा तो आपने क्या मान लिया कि इसने मेरा बहुत नुकसान किया लौकिक दृष्टि से तो ये नुकसान है हमें स्वीकार है सांसारिक स्तर पर तो ठीक है ये नुकसान है पर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कोई नुकसान नहीं है जो आपकी गुडविल है जिसका नुकसान हुआ वो आपकी आत्मा का हिस्सा है क्या नहीं है तो उसने आपकी गुडविल खराब की आपकी आत्मा का तो तीन परसेंट काटने लिया कैंची से आपकी आत्मा तो सुरक्षित है सौ प्रतिशत उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा गुडविल खराब की वो आत्मा से अलग चीज है लोग आपको खराब नजर से देखते हैं इससे आपकी आत्मा में कोई रगड़ा नहीं लगता है कोई आत्मा की स्थिति नहीं है पांच परसेंट कि उसको खुरज खुरज के छीन गए उखाड़ के हिस्सा लेके उधर <laughs> ले जाएंगे आपका हिस्सा ऐसा तो कुछ भी नहीं पर व्यक्ति क्योंकि उस गुडविल को अपनी आत्मा का हिस्सा मानता है ये अविद्या है लोग उसको अपमान की दृष्टि से देखते हैं उसको वो अपनी आत्मा का नुकसान समझ रहा है ये अविद्या है इस अविद्या के कारण उससे द्वेष होता है कि इसने मेरा बड़ा नुकसान कर दिया लोग मुझे अब खराब दृष्टि से देखते हैं और मेरा जो है वो गुडविल खराब कर दी मेरी और बॉस की नज़र में मुझे बेकार बना दिया और अब मेरी आगे इंक्रीमेंट रुक जाएगी या कुछ और नुकसान होगा या डांट फांट पड़ेगी अपमान सहना पड़ेगा तो वो सारा अविद्या के कारण व्यक्ति मानता है ये सब मेरी आत्मा के हिस्से हैं जो इसकी वजह से सारे छूट जाएंगे जो सारे नष्ट हो जाएंगे इसलिए उससे द्वेष होता है और अगर शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से आप चिंतन करें तो आपकी आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ा हो कुछ भी नहीं बिगाड़ा यह तत्व ज्ञान जब यह तत्व ज्ञान होता है तो उससे द्वेष नहीं होता और वो उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ देता है किसी ने जो भी मेरा बाह्य नुकसान किया बाहर का जो भी नुकसान किया संपत्ति का इंक्रीमेंट का सम्मान का जो भी हानि की इसका दंड या तो इसको कभी बॉस समझ में आएगी बॉस को तो वो दे देगा अगर बॉस को समझ में नहीं आई तो फिर ईश्वर उसको दंड देगा तो मैं क्यों टेंशन में मेरा जो नुकसान हुआ भगवान मुझे उसकी पूर्ति कर देगा तो आपको द्वेष नहीं होगा तो ऐसे यह अविद्या राग द्वेष को पैदा करती है और तत्व ज्ञान राग और द्वेष दोनों का निवारण कर देता है और व्यक्ति शांति से जीता इसका नाम है योग ये है असली योग ऐसे जीना चाहिए तो गिने चुने लोग जानते हैं इस तरह से जीना बाकी तो सब अविद्या में ही जी रहे राग में जी रहे द्वेश में ही जी रहे वो कोई जीना थोड़ी ठीक है जी तो ये सूत्र भी पूरा हुआ बाकी चर्चा कल करेंगे कल सुबह की कक्षा नौ बजे नौ बजे सुबह मिलते हैं एक बार ओंकार बोलेंगे लंबे स्वर से ओ